मंत्र पाठ करेंगे ओ ओ। जचन है क्योंकि वो वैसे भी वैर त्याग हम्म? वैर त्याग करने के लिए ही तो कार्य कर रहा है जी जो तो उससे विशेष जो उपलब्धि बताएंगे हम्म। सर्व प्राणियों का वैर त्याग हो जाता है हम्म। यथा योग्य सबका पूरा नहीं छूटेगा और जो सन्निधि में नहीं आएगा अहिंसक की उसका नहीं छूटेगा जो जो सन्निधि में आएगा उन सबका तो अभी भी हम कितने भी क्रूर क्यों न हो मैं हर रोज गाय काटता हूँ हम्म। मेरा एक कुत्ता प्यारा है उसके साथ तो मेरा वैर त्याग तो हो ही गया फिर से फिर से बोलिए आप बहुत बड़ा हिंसक है ठीक है और फिर भी कुछ जानवरों से आदमियों से प्यार करते हैं ठीक है तो उनके प्रति तो वैर भाव छूट ही जाता है तो ये इसका फल है ना जब आपने दूसरे प्राणियों से प्रेम से व्यवहार किया हम्म। ये अहिंसा है तो अहिंसा का पालन किया तो उनका व्यवहार भाव छूटेगा आपका उनके प्रति छूटेगा उनका आपके प्रति छूटेगा तो ये लाभ हुआ ना अगर आप उनसे वैरभाव करेंगे तो वो उनका भी नहीं छूटेगा किसी और से द्वेष रखते हैं आप इनसे नहीं रखते तो जिनसे नहीं रखते उनका भी द्वेष आपसे छूट जाएगा जिनसे रखते हैं उनका नहीं छूटेगा तो वैरभाव त्याग करने का या अहिंसा का पालन करने का लाभ हुआ कि नहीं हुआ आप ये चाहते हैं हाँ। कि एक व्यक्ति पहले तो सभी के साथ वैर भाव का त्याग करे तब कोई उसके साथ वैर भाव छोड़े आप ये चाहते हैं ऐसा तो हो नहीं सकता किसी के साथ भी नहीं हो सकता क्योंकि संसार में तीन तरह के लोग होते हैं एक मित्र होते हैं एक शत्रु होते हैं एक उदासीन होते हैं तो तीनों के साथ एक जैसा व्यवहार कर नहीं सकते हम तो सभी के साथ तो हम ऐसे प्रेम से नहीं रह सकते ना जो मित्र हैं उनके साथ प्रेम से रहेंगे जो शत्रु हैं उनसे हम प्रेम भी नहीं करेंगे द्वेष भी नहीं करेंगे तो व्यवहार में अंतर आएगा तो हम एक जैसा नहीं कर सकते संभव ही नहीं और जो उदासीन है उनसे तो कोई लेना नहीं कोई देना नहीं व्यवहार ही नहीं उनसे तो तो वहां भी ये बात लागू नहीं हो पाएगी कि हम सबके साथ प्रेम भाव से रखें रहें हमारी सीमा छोटी है क्षमता कम है हमारी पहुंच बहुत दूर तक नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं जितने लोगों से हमारा संपर्क होता है मनुष्य हो पशु पक्षी हो जो भी जहां जहां तक हमारा संपर्क होता है यदि हम उनमें छटनी कर लेते हैं कि कौन लोग अच्छे हैं कौन से प्राणी ठीक हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार रखो जो खराब है उनसे बच के रहो अपनी सुरक्षा रखो द्वेष मत करो तो हमने द्वेष नहीं किया किसी से भी तो ऐसी स्थिति में तो जो दुष्ट लोग हैं दुष्ट प्राणी हैं उनसे हम बच के रहते हैं द्वेष नहीं करते और जो अच्छे प्राणी हैं अच्छे मनुष्य हैं सब उनके साथ प्रेम से रहते हैं तो हमने अहिंसा का पालन किया इतना हम कर सकते हैं और जितना इतना हम करते जाएंगे तो जो जो हमारे संपर्क में आएंगे चाहे मनुष्य हो या अन्य प्राणी हो गाय हो घोड़ा हो कुत्ता हो सांप हो तो वो हमारे साथ हिल मिल जाएंगे तो हम उनसे प्रेम से व्यवहार रखते हैं तो उनका भी द्वेष छूट जाएगा तो अहिंसा का लाभ तो है यदि हम उनसे प्रेम से व्यवहार नहीं करेंगे तो द्वेष नहीं छूटेगा करेंगे तो छूट जाएगा इसलिए इसका लाभ हुआ और जो व्यक्ति फिर ऐसे आगे अभ्यास करता जाएगा तो वो सबके साथ द्वेष भाव को छोड़ देगा तो ऊंची अवस्था आने पर अहिंसा का पालन करते हुए ऊंची अवस्था जब आएगी तो वो किसी से भी द्वेष नहीं करेगा शत्रु से भी द्वेष नहीं करेगा तो उसके मन से तो सभी के प्रति वैरभाव छूट गया शत्रु के प्रति भी मित्र के प्रति भी किसी के प्रति वो नहीं रखता वैरभाव उसका तो सबके प्रति छूट गया पर बाकियों का तो सबका नहीं छूटेगा जो जो उसके संपर्क में आएंगे उसके व्यवहार को समझेंगे उन उनका उतना उतना छूटेगा वो भी सबका बराबर मात्रा में नहीं छूटेगा क्योंकि हरेक के संस्कार एक जैसे नहीं हरेक के विचार बुद्धि अनुभव एक सा नहीं इसलिए सबका बराबर मात्रा में नहीं छूटेगा जिसकी जैसी योग्यता होगी उतना उतना छूटेगा ऐसे समझना चाहिए अहिंसा की प्रतिष्ठा वैराग्य से पहले हो जाएगी हाँ ये तो बहुत पहले हो जाएगी बहुत पहले हो जाएगी बहुत पहले हो जाएगी तो इसकी परीक्षा हम कैसे गुस्सा आता है कि नहीं आता है हम मन में क्या सोचते हैं दूसरों के प्रति तो हमें पता चल जाएगा अगर गुस्सा आता है तो अभी हमारा अहिंसा का स्तर ऊंचा नहीं हुआ तो फिर हमने जो सीखा था कि तनु जो है अविद्या का जो तनुभाव था हाँ, हाँ तो वैसे तो अविद्या अभी तनु नहीं हुई ना नहीं। अभी नहीं हुई अविद्या तनु हो जाएगी काम क्रोध लोग ये सब कमजोर पड़ जाएंगे और गुस्सा आना भी कम हो जाएगा तो जैसे जैसे गुस्सा हमारा घटता जाएगा स्वस्थ रहेंगे प्रसन्न रहेंगे मस्त रहेंगे चिंता तनाव टेंशन से बच के रहेंगे तो उतना उतना हमारा अहिंसा का स्तर ऊंचा उठता जाएगा अथवा यूं को जितना अहिंसा का स्तर ऊंचा उठेगा उतने ये लक्षण घटते जाएंगे ये क्रोध आदि द्वेष आदि कम होते जाएंगे ऐसे पता चल जाएगा और फिर हम अपना और आत्मनिरीक्षण करेंगे मन में विचार करेंगे और अपने को चेक करेंगे क्या हम किसी से द्वेष रखते हैं क्या हम किसी के प्रति झगड़ा गुस्सा करते हैं या किसी से बदला लेने की इच्छा रखते हैं ऐसे अपना परीक्षण निरीक्षण करेंगे तो पता चल जाएगा कि अगर हम द्वेष रखते हैं बदला लेने की इच्छा रखते हैं तो इसका अर्थ है हमारा अहिंसा का स्तर अभी ऊंचा नहीं उठाएगा ऐसे पता चल जाएगा कि जब देखता हूँ ना तो सामान्य रूप से तो किसी से ये नहीं होता पहले ऐसा होता था कि किसी ने किसी कलीग ने हम्म। कुछ किया तो हम्म। उसके प्रति जोश आता था गुस्सा आता उससे ठीक बात आजकल तो ऐसा नहीं होता है नहीं हो रहा है नहीं हो रहा बहुत अच्छा है और उसने कुछ बुरा भला भी कहा हाँ। तो भी वैर उपेक्षा उपेक्षा कर देते उपेक्षा या उसको प्यार से फिर से समझाते हैं हाँ। ठीक काम तो करना रहता है ना हाँ। साथ मिल मिल कर उपेक्षा का मतलब उस घटना की उपेक्षा कर देते घटना की उपेक्षा जो उसने उल्टा सीधा बोला उस घटना की उपेक्षा कर दी और आगे फिर अपना व्यवहार चालू रखा हाँ। क्योंकि रहना है ऑफिस में सबको मिलकर काम करना है तो <laughs> छोड़ के भाग तो सकते नहीं ना उसको निकाल सकते हैं ना हम भाग सकते हैं रहना तो वही है तो उस घटना की उपेक्षा कर देते फिर अपना व्यवहार चालू रखते और संभव हो कहीं भी अवसर मिल जाए तो उसको बताना भी चाहिए हाँ। कि भाई आपने ये व्यवहार किया ये थोड़ा ठीक नहीं था अच्छा। हाँ नहीं तो क्या होगा बताएंगे नहीं तो फिर वो गलती दोबारा दोबारा करता जाएगा उसको समझ ही नहीं आएगी मैंने गलती की है जब वो गलती को समझेगा ही नहीं तो फिर सुधार क्या करेगा इसलिए उसको बताना चाहिए बताना पड़ेगा आप बताएं कोई दूसरा बताए कोई बॉस बताए कोई भी बताए थ्रू हाँ, बॉस ही हाँ ब्रॉस के थ्रू कहवाओ उसके कान में जानी चाहिए कि ये मेरा व्यवहार गलत है एक बार दो बार पांच बार जानी चाहिए तो फिर वो खुद भी सोचेगा कि सब लोग मुझे टोक रहे हैं वो भी ऐसा कर रहा है ये भी ऐसा कर रहा है शायद मेरे व्यवहार में कहीं गलती है फिर वो सोचेगा और सोचेगा तो उसको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि हाँ ये बात गलत है और सब लोग भी इसको ठीक नहीं मान रहे तो ये गलती होगी फिर वो उसको छोड़ने का प्रयास करेगा संस्कार अच्छे होंगे तो छोड़ देगा और अच्छे नहीं होंगे तो वो हाँ हाँ करता रहेगा और गलती भी करता रहेगा स्वीकार तो कर लेगा कि हाँ ये गलती है पर वो छोड़ेगा नहीं तो उसके संस्कारों पर डिपेंड करता है फिर हम आगे उसका और परीक्षण करेंगे भाई ये सुधरता ही नहीं है सामने तो स्वीकार कर लेता है कि हाँ ये गलती है और फिर वो गलती छोड़ता भी नहीं करता ही जाता है तो इससे व्यवहार कम रखना ही ठीक है बस ठीक है नमस्ते नमस्ते कर ले ज्यादा संपर्क नहीं रखना चाहिए फिर वो व्यक्ति अपने आप सेटिंग कर लेगा उससे कट जाएगा ऐसे ऐसे होगा और कोई शंका और इन लाभों पे कितना ध्यान देना चाहिए ऐसे ही लाभ पर ध्यान देने से उस कार्य में रुचि बढ़ती ये मनोविज्ञान का सिद्धांत है नमस्ते जी किसी भी वस्तु का लाभ आप जानेंगे सुनेंगे पढ़ेंगे तो उसमें रुचि बढ़ेगी और रुचि बढ़ेगी तो फिर जोश के साथ काम करेंगे उस चीज को प्राप्ति करने के लिए पुरुषार्थ भी करेंगे अधिक जिस चीज का हम लाभ नहीं जानते उसमें रुचि नहीं बनेगी रुचि नहीं बनेगी तो हम मेहनत नहीं करेंगे बस ठीक है चल रही है सब चल रही है नहीं चलता रहेगा फिर प्रगति तीव्र नहीं होगी इसलिए लाभ को जानना चाहिए तो ये लाभ इसीलिए बताए जा रहे हैं कि अहिंसा का पालन करने से ये लाभ है आप आनंद से जियेंगे शांति से जियेंगे चिंता क्रोध तनाव टेंशन सब छूट जाएगी प्रसन्न रहेंगे मस्त रहेंगे तो हर व्यक्ति चाहता है मैं खुश रहूं प्रसन्न रहूं जैसे वो ट्रक के पीछे लिखा हम्म। हर हाल में खुश रहना चाहिए लिख तो दिया उन विचारों को पता तो है नहीं कि हम हर हाल में कैसे खुश रह सकते हैं विधि तो पता नहीं पर मोटा मोटा सुन तो लिया लिख तो दिया कि भाई हर हाल में खुश रहना चाहिए तो सभी लोग खुश रहना चाहते हैं अगर उनको पता चल जाए कि हम अहिंसा का पालन करेंगे तो हर हाल में हम खुश रह सकते हैं क्रोध मत करो द्वेष मत करो ईर्ष्या मत करो जलन मत करो तो ऐसे अगर समझ में आ जाएगा तो लोग खुश भी रहेंगे इसलिए उनको लाभ बताना चाहिए ताकि उनकी प्रवृत्ति और एक थोड़ा हटके प्रश्न है हम्म, बोलिए नव नियमों का पालन योग का अनुष्ठान केवल जब हमारी सत्ववृत्ति होगी हम्म। तभी बहुत अच्छा होगा ठीक बात है अगर रजा और तम रहेगी तो नहीं होगा हाँ तो कम हो जाएगा और आचार्य से हमने एक मैंने बात जानी अब तक तो मुझे पता नहीं थी वो स्ट्राइक हम्म। हो गई कि हम जितने भी कार्य करते हैं बाकी जो ब्रह्म यज्ञ हो देव यज्ञ हो पितृ यज्ञ जो भी पांच यज्ञ हमारे हैं वो जितने भी करते हैं वो केवल इसलिए करते हैं कि सत्वगुण बड़ा रहे दिन भर उसका स्तर बढ़ा रहे ठीक है तो आ, कभी कभी अगर वो छूट जाता है उसमें से हम्म। बहुत आ, वो तो दबाव करने हैं हाँ। उतना हम कर नहीं पाते कभी कभी हम्म। तो क्या करना चाहिए उस स्थिति में प्रसन्न रहने के लिए उसको छोड़ना चाहिए मन में फिर एक ग्लानी रहती कि आज ये छूट गया तो प्रायश्चित भी करना चाहिए वैसे तो ये जो पंचमहायज्ञ है ये प्रायश्चित के रूप में भी है ये स्वयं प्रायश्चित अब ये नहीं करेंगे तो इसका और क्या प्रायश्चित करेंगे ये स्वयं प्रायश्चित है तो प्रायश्चित तो करना ही चाहिए जैसे हमारे से कहीं हिंसा भी हो जाती है चूल्हे में चौके में रसोई में झाड़ू पोछे में ऐसे ऐसे प्राणियों की हिंसा हो जाती है लोग कहते हैं जी बाथरूम में कॉकरोच मारने पड़ते हैं वो हिट फ्लिट मारना पड़ता है तो क्या करें भाई इसके लिए तो मानसिक प्रसन्नता वापस आ जाए इसीलिए तो हवन करने को बोला उधर मानसिक प्रसन्नता खो जाती है तो हवन करो ध्यान करो वापस आ जाएगी ये उसका प्रायश्चित है एक तरह से तो थोड़ा प्रायश्चित भी हो जाए हमारा वो हिंसा का संस्कार भी ना बने और कुछ धार्मिकता भी बढ़े सत्वगुण बढ़े इसीलिए ये पंचमा यज्ञ किए जाते हैं फिर कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है हम पांच यज्ञ नहीं कर पाए यज्ञ हवन नहीं कर पाए यात्रा में रहे ट्रेन में रहे या कार में रहे लंबी यात्रा थी तो अवसर नहीं मिला तो उस दिन फिर मानसिक पाठ कर लेना चाहिए दुखी नहीं होना चाहिए उस दिन मानसिक तो कहीं भी बैठ के कर सकते हैं ट्रेन में बैठे हैं फ्लाइट में बैठे हैं आप मानसिक पाठ तो कर ही सकते हैं तो उस दिन हवन स्थूल रूप से नहीं हुआ तो मानसिक कर लो और वैसी भावना बना लो कि हमारा मन शुद्ध रहे प्रसन्न रहे शांत रहे सबके भले की भावना सर्वे भवंतु सुखी ना ऐसे मानसिक पाठ कर सकते हैं वाणी से बोल के कर सकते हैं तब ऐसा कर लेना चाहिए आपत्ति काल में तो अफसोस नहीं बनाना चाहिए कि देखो आज ये हवन नहीं हुआ आज वो रह गया ये सोचना गलत इससे तो फिर अवसाद हो जाएगा तो लाभ क्या होगा जिस काम के लिए हम हवन करना चाहते थे वो काम तो सिद्ध हुआ ही नहीं जी और बोलिए और एक मैंने मीमांसा में पढ़ा था ये जो संध्या हम करते हैं आप नहीं फल हम्म। नहीं मिलता उसका हम्म। उसका फल इतना ही मानना चाहिए कि जो हम अशुद्धियां होती है मन में हम्म। वो बड़े नहीं वो एक तरह से शुद्धि है एक तरह से ठीक है तो ये काम पड़ा आपने ये मेरे ख्याल से शबर भाष्य में या और बाकी इष्टियों का तो फल मिलता है यज्ञ करता को जिसने कर्म किया है उसका वैसे लाभ नहीं होता जैसे स्वर्ग की प्राप्ति हेतु क्या दिया क्यों नहीं होता इष्टि करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा हाँ। तो ये जो संध्या करेंगे इसका फल क्यों नहीं मिलेगा इसका फल केवल इतना ही जो हम मन में अशुद्धियां चढ़ती है ना उस पर हम्म। हम झाड़ू मारते हैं उसकी शुद्धि तो का फल तो हुआ ना हाँ। फल तो हुआ ना फल का निषेध नहीं कर सकते ये तो नियम है जब कर्म करेंगे तो फल तो मिलेगा फल क्या क्या हो सकते हैं वो अलग प्रश्न है फल मिलेगा या नहीं मिलेगा ये अलग प्रश्न है फिर क्या फल मिलेगा वो अलग प्रश्न है तो वो बात तो सब पर बराबर लागू होती है इष्टि करोगे उसका अलग फल है संध्या करेंगे उसका अलग फल है पितृ सेवा करेंगे उसका अलग फल है प्राणियों की रक्षा करेंगे उसका अलग फल है फल तो सबका मिलेगा जिसका जो भी फल है वो मिलेगा अब अगली बात की क्या फल मिलेगा तो तो ये कहते हैं कि संध्या करने से कोई विशेष फल नहीं मिलेगा केवल ग्लानी की निवृत्ति होगी अशांति की निवृत्ति होगी निवृत्ति मात्र होगी कष्ट क्लेश की सुख प्राप्ति नहीं होगी तो उसमें उसको हेतु देना पड़ेगा क्यों नहीं होगी ये तो प्रतिज्ञा हो गई ना पक्ष हो गया कि वो तो एक शोधन मात्र है इसको सिद्ध करो कि ये शोधन मात्र है और इससे फल नहीं आनंद नहीं मिलेगा प्रसन्नता नहीं आएगी सत्वगुण नहीं बढ़ेगा इसका हेतु देना पड़ेगा कोई प्रमाण देना पड़ेगा बिना हेतु प्रमाण के तो बात सिद्ध होती नहीं फिर चाहे स्वामी लिखे चाहे आप लिखो या मैं लिखू कोई भी लिखे कोई भी बोले किसी की बात प्रमाणिक नहीं प्रमाण तो चार है प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्द उन प्रमाणों से सिद्ध होना चाहिए सिर्फ मेरे कहने से नहीं तो उसके लिए कोई प्रमाण हो तर्क हो हेतु हो तो लाइए कि उसका विशेष फल क्यों नहीं मिलेगा और इष्टि का क्यों मिलेगा <laughs> ये उत्तर देना पड़ेगा शायद वो दो प्रकार की स्टिया मानते हैं हम्म। एक तो उससे लाभ हो स्वर्ग हम्म। और दूसरी प्रायश्चित स्टिया रहती अलग सा लाभ नहीं मिलता जैसे अन्य स्टियों से मिलता है वो वो ठीक बात शायद उन फलों का दो वो ठीक है वो ठीक है कि कुछ प्रायश्चित रूप कर्म है उस कर्म का उद्देश्य ही प्रायश्चित है वो कोई स्वतंत्र नवीन कर्म नहीं जो स्वतंत्र नवीन कर्म है उसका तो विशेष फल प्राप्त होगा और जो प्रायश्चित रूप है उसका यही फल होगा कि जो गलती हुई उसका जो संस्कार बना वो संस्कार नष्ट हो जाएगा इसका इतना ही फल है अब आपको यह सिद्ध करना है कि जो संध्या है ये प्रायश्चित रूप कर्म है केवल मात्र अथवा एक स्वतंत्र नवीन कर्म है जिसका अतिरिक्त फल मिलता है वो सिद्ध करना पड़ेगा तो वो सिद्ध करें तर्क से जब तक वो सिद्ध नहीं कर पाएंगे तब तक ये स्थापना नहीं कर सकते कि वो केवल प्रायश्चित मात्र है यहां तो संध्या से परमात्मा की प्राप्ति बताइए हम्म? परमात्मा प्रकाशित है श्रद्धाध्याय योग संपत्तिया परमात्मा प्रकाशित है योग दर्शन में लिखा तो इसलिए वो बात ठीक नहीं है आगे चले चलिए कहां तक हो गए सूत्र सूत्र हो गया पैंतीसवां हो गया छत्तीसवां चलेगा अब प्राणियों का वैरभाव नहीं छूटता इसके लिए भाष्य में एक पंच पंचतंत्र का एक श्लोक भी दे रखा है सिंहो व्याकरण से कर्तुरहरत प्राणान प्रियान पाणिने तो इस श्लोक में बताया कि जो पाणिनि ऋषि थे व्याकरण के बनाने वाले उनको शेर ने मार खाया शेर ने मार डाला खा गया उनको फिर मीमांसा दर्शन के बनाने वाले जैमिनी ऋषि के थे उनको हाथी ने मार दिया एक हाथी ने जंगली हाथी ने मार दिया उनको फिर एक पिंगल आचार्य थे जिन्होंने छंद शास्त्र बनाया वो अच्छे ऊंचे ऋषि थे उसको मगरमच्छ ने खा गया मार दिया <laughs> ये तीन उदाहरण दिए उन्होंने इससे पता चलता है सब प्राणियों का वैरभाव योगी के प्रति नहीं छूटता अहिंसक के प्रति नहीं छूटता क्योंकि उन्होंने इसकी सन्निधि नहीं की इन ऋषियों की सन्निधि नहीं की उन प्राणियों ने इसलिए उनका वैरभाव नहीं छूटा जिस जिसने सन्निधि की उसका छूट गया यथा योग्य तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए फिर जो कहते हैं कि नहीं नहीं शास्त्र में तो ऐसा ही लिखा है तो फिर वो मीमांसा को नहीं जानते वाक्यार्थ को नहीं जानते वक्ता के तात्पर्य को नहीं जानते उनके लिए हम ये उत्तर देते हैं केवल आप शब्दों पर अटकेंगे अगर कि सर्व प्राणी नाम भवती तो ये बताओ कि ईश्वर अहिंसक है या नहीं ईश्वर तो पूर्ण अहिंसक है वो तो कभी भी हिंसा अन्याय नहीं करता तो सब लोगों का ईश्वर के प्रति तो वैरभाव छूट जाना चाहिए क्या ईश्वर के प्रति छूट गया जब ईश्वर के प्रति भी नहीं छूटा जो कि पूर्ण अहिंसक है कभी भी गड़बड़ नहीं करता अन्याय नहीं करता उसको भी लोग गाली देते हैं उस पर झूठे आरोप लगाते हैं खूब लानत अनालत करते हैं तो फिर मनुष्यों को तो कौन छोड़ेगा उनके प्रति तो कैसे छूट जाएगा वैरभाव इसलिए ये बात गलत है कि सब प्राणियों का योगी के प्रति वैरभाव छूट जाता है ये बात गलत है कल मैंने थोड़ा विचार किया था इस पर कि सत्य हम्म। का जो दंड है वो बड़ा होना चाहिए हम्म, हम्म, तो ऐसे मुझे लग नहीं रहा था तो फिर बाद में सोचा कि जितने भी अभी मत पंथ संप्रदाय है वैदिक धर्म से छोड़कर वो तो सब असत्य फैला रहे तो उनको तो सबसे ज्यादा दंड मिलना चाहिए इसके कारण ही फिर बहक कर ये बाकी हाँ, ठीक बात ये तो सबसे बड़े अपराधी तो ये लोग सबसे बड़े अपराधी ये हैं संप्रदाय वाले इस बात को लोग नहीं समझते और हम कहेंगे तो इनके समझ में नहीं आएगी उल्टा हमको पत्थर मारेंगे हमको गाली देंगे और हमको दुश्मन कहेंगे ये संप्रदाय वालों का दुश्मन है संप्रदाय वालों को अपराधी कहता है वो समझते नहीं क्योंकि समाज में जो हमारी व्यवस्था है वेदों के अनुसार उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चार वर्ग हैं इनमें सबसे बड़ा कौन हाँ। ब्राह्मण ये सारे प्रवक्ता ब्राह्मण ही तो है संप्रदाय वाले प्रवक्ता संचालक आचार्य जो भी हैं ये ब्राह्मण कोटि में आते हैं और ब्राह्मण का पद सबसे ऊंचा है तो जो सबसे ऊंचा बैठा है अगर वो गलती करता है तो वो सबसे बड़ा अपराधी ऐसा शास्त्र का सिद्धांत है छोटा व्यक्ति गलती करे तो उसका अपराध कम माना जाता है बड़ा व्यक्ति गलती करे तो अधिक माना जाता है तो इनमें सबसे बड़े तो यही है संप्रदाय वाले और अब ये गलत पाठ पढ़ा रहे लोगों को इसलिए बड़े अपराधी ये है सच तो ये है पर लोग समझते नहीं स्वीकार नहीं करते समझना चाहते भी नहीं उल्टा झगड़ा कर लेते पर हमको ये बात समझनी चाहिए आगे चलते हैं छत्तीसवां सूत्र देखिए और बोलिए सत्य प्रतिष्ठायाम सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्व क्रिया फलाश्रयत्व सूत्र का सुनिए सत्य की जीवन में प्रतिष्ठा हो जाने पर मतलब जब व्यक्ति उच्च स्तर पर सत्य का पालन करता है एक एक कदम फूंक फूंक के रखता है कहीं भी झूठ नहीं बोलता बड़ी सावधानी से परीक्षा करके बात कहता है सब जगह हमेशा पूरा सावधान रहता है ऐसा होने पर क्रिया फलाश रहत्व उसका फल ही होता है जो उसकी क्रियाएं हैं वो सारी सफल हो जाती हैं उसकी सारी योजनाएं सारे जो उसके सामाजिक सेवा के कार्य हैं वो सारे फल के आश्रय वाले हो जाते हैं फल के आश्रय मतलब फल सहित हो जाते हैं वो सफल हो जाते हैं वो सारी योजनाएं कंप्लीट हो जाती हैं वो जो चाहता है वो काम हो जाता है इसके पीछे क्या मनोविज्ञान है वो सच बोलता है और समाज के लोग उसका परीक्षण करते हैं उसने जो बोला लोगों ने देखा कि जो बोलता है वही करता है फिर एक बार देखा दो बार देखा बीस बार देखा पचास बार देखा पांच दस साल तक उसका बीस साल तक परीक्षण किया तो लोग देखते जा रहे हैं कि ये जो बोलता है वैसे ही करता है छलकपट नहीं करता झूठ नहीं बोलता हेरा फेरी नहीं करता कोई गड़बड़ नहीं करता तो लोगों का उस पर विश्वास हो जाता है कि ये सच बोलता है ये जो कहेगा वही करेगा इतना विश्वास हो जाने पर 10-20 साल परीक्षण करने के बाद अब वो कहता भाई मेरी ऐसी योजना है आगे मैं एक संस्था चलाना चाहता हूँ उसमें ऐसे ऐसे विद्वान तैयार करे जाएंगे ब्रह्मचारी बनाएंगे योगाभ्यासी बनाए जाएंगे और ये ये हमको काम करना है देश के लिए धर्म के लिए समाज के लिए ये काम करना है तो वो जब ऐसा बोलता है तो लोग तो परीक्षण कर ही चुके हैं कि ये जो बोलता है वही करेगा ये तो सच बोलता है तो लोग उस पर विश्वास करते हैं और उसको सहयोग देते हैं तो उसकी योजना है कि मुझे गुरुकुल चलाना है तो गुरुकुल के लिए लोग सहयोग दे देंगे उसका काम पूरा हो जाएगा योजना ठीक हो जाएगी चल पड़ेगी वो कहेगा मुझे एक अस्पताल खोलना है रोगियों के लिए बेचारों मरते रहते हैं इनको कोई चिकित्सा नहीं मिलती वो विश्वास करेंगे कि अस्पताल बोल रहे हैं तो अस्पताल ही खोलेगा कोई और दूसरा काम नहीं छेड़ेगा तो इस तरह से लोग उस पर विश्वास करते हैं और उसकी जो जो योजनाएं होती हैं वो सारी सफल होती जाती हैं फिर वो उतनी ही योजना बनाता है जितनी वो पूरी कर सके क्योंकि वो सच बोलता है और उसको मालूम है कि कितने मेरे सहयोगी हैं उनका शक्ति सामर्थ्य कितना है वो कितना सहयोग दे पाएंगे तो जितने उसके सहयोगी हैं जितना वो सहयोग दे सकते हैं उनकी शक्ति है वो उतनी ही योजना बनाता है और उतनी उसकी सफल हो जाती है इसलिए उसकी सारी योजनाएं सफल हो जाती हैं कोई फेल नहीं होती शक्ति सामर्थ्य से अधिक वो योजना बनाता ही नहीं होती अपनी शक्ति से अधिक नहीं बनाता और सहयोगियों की शक्ति से अधिक नहीं बनाता इसलिए कोई योजना फेल ही नहीं होती उसकी ये फल है ये लाभ है इसका सत्य बोलने का उसको सब प्रकार से ठीक सहयोग मिलता है और उसके सारे काम पूरे हो जाते हैं और फिर वो आगे देखिए भाष्य में क्या लिखते हैं बोलिए धार्मिको भूया धार्मिको भूया इति भवती इति भवती धार्मिक धार्मिक स्वर्गम ही स्वर्गम प्राप्नुहि इति इति स्वर्गम प्राप्नोति स्वर्गम प्राप्नोति अमोघास्य अमोघास्य भवती वाग भवती कहते हैं अस्य वाक अमोघा भवती इसकी वाणी इसकी वाणी बिल्कुल सफल होती है व्यर्थ कभी नहीं जाती है जो बोलता है वैसा ही होता है जैसा बोलता है वैसा ही होता है वो किसी को कहता है तू धार्मिक हो जा तो वो धार्मिक हो जाएगा इसकी वाणी व्यर्थ नहीं जाती सच्ची होती है फिर किसी को बोलेगा तू सुख सुखी हो जा स्वर्गम प्राप्त हुई स्वर्ग मतलब सुख को प्राप्त करना तो सुखी हो जा तो वो सुखी हो जाता है तो उसकी वाणी में इतनी शक्ति बल आ जाता है वो जैसा कहता है वैसा ही होता है तो इसके पीछे ऐसा समझना है कि वो कहता ही वो है जो सामने संभव हो वो असंभव बात कहता ही नहीं क्योंकि वो परीक्षा पूर्वक बोलता है सत्य बोलने का तो मतलब बताया था ना तस्मात परीक्ष सर्वभूत हितम सत्यम एवं वदेत परीक्षा करके सब प्राणियों के लिए हितकारी सच ही बोले तो वो बोलता ही परीक्षा करके किसी को बोलने से पहले उसका परीक्षण करता है ये सुखी होगा कि नहीं होगा ये सुधरेगा या नहीं सुधरेगा ये धार्मिक बनेगा कि नहीं बनेगा पहले परीक्षा कर लेता है और जो उसका परिणाम आता है परीक्षा में उसको पता लगता है कि हाँ ये सुधर सकता है तो उसी को बोलेगा तुम सुधर जाओ तुम धार्मिक बन जाओ उसी को ही बोलता है जिसके सुधरने के लक्षण है तो जब लक्षण है सुधरने के और वो उसको उपदेश देता है उसका प्रभाव भी होता है वो अहिंसा का पालन करता है तो उसकी दूसरे व्यक्ति की उस पर श्रद्धा भी होती है तो जितनी श्रद्धा होती है और वो उसी हिसाब से उसको उपदेश देता है तो वो लाभ उठाता है और वो धार्मिक बनता जाता है जित पुरुषार्थ करेगा जितनी जितनी श्रद्धा रखेगा उतना उतना वो धार्मिक होता जाएगा तो इस प्रकार से इसकी वाणी व्यर्थ नहीं होती कभी भी सब बात परीक्षा पूर्वक ही कहेगा और उसके परिणाम आते जाएंगे तो देखेगा ये नहीं सुधरने वाला बहुत लंबा परीक्षण कर लिए तो उसके बारे में डिक्लेयर कर देगा ये आदमी इस जन्म में नहीं सुधर सकता <laughs> वो डिक्लेयर कर देगा ये नहीं सुधरने वाला तो ये ऐसा क्यों बोला उसने कब बोला 20 साल 30 साल परीक्षण करके फिर बोला देख लिए सारे लक्षण उसके खूब प्रयास करके देख लिए ये सुधरने का लक्षण इसमें कुछ नहीं दिखता तब उसकी वाणी व्यर्थ नहीं जाएगी और वो कहेगा ये आदमी इस जन्म में तो नहीं सुधर सकता अगले जन्म में डंडे खा खा के फिर सुधरेगा अगले जन्म में बीस जन्म में दस जन्म में जब भी उसका दंड पूरा होगा तब उसको होश आएगा अभी तो नहीं सुधर सकता ये अच्छा अगर अभी इसको दंड मिल जाए तो इसी जन्म में इसको समाज के लोग दंड दे दें तो तो सत्यवादी कहता है कि अभी अगर इसको समाज ने दंड दे भी दिया ना तो ये दंड के भय से दब जाएगा इसकी वृत्ति नहीं सुधरेगी इसकी वृत्ति नहीं सुधरेगी वृत्ति के सुधरने में बहुत टाइम लगता है बहुत समय लगता है और वो तब सुधरती है जब व्यक्ति स्वयं चाहता हो जब स्वयं पुरुषार्थ करता है वो जब ये संकल्प करे इच्छा करे कि मुझे सुधरना है जब खुद चाहेगा तब वृत्ति सुधरती है और जब वो खुद तो चाहता नहीं हो तो फिर डंडे से पीट पीट के उसको जेल में बांध के रखते हैं तो वो कोई सुधरा हुआ नहीं कहा जाएगा वो तो दबा हुआ है डंडे के भय से दबा हुआ है कि मैंने गड़बड़ की तो डंडे पड़ेंगे इसलिए थोड़ा ठीक ठाक चलो दब के चलो वो दबा हुआ है सुधरा नहीं है तो ऐसे लंबे परीक्षण के बाद व्यक्ति ये भी कह सकता है ये इस जन्म में सुधरेगा या नहीं सुधरेगा लंबे परीक्षण के बाद वो कह सकता है फिर वो जो कहता है ठीक ही कहता है क्योंकि वो परीक्षा करके बोलता है इसलिए उसकी वाणी व्यर्थ नहीं जाती अमोघा अस्य वाक भवती उसकी वाणी सच्ची होती है तो इसका कुछ लोग गलत अर्थ निकालते हैं कि उसकी वाणी अमोघ होती है कभी फेल नहीं होती वो बिल्ली वो कहे कि हे बिल्ली तू कुत्ता बन जा तो वो कुत्ता बन जाएगा उसकी वाणी बेकार नहीं होती कभी भी जैसे वो कथा आती है ना मूष का पुनः चूहा फिर से वापस चूहा बन गया एक कथा आती है पंचतंत्र में या कहां पर होगी कहीं पशु पक्षियों की कथाएं आती रहती हैं पुस्तकों में एक चूहा था तो एक को ऋषि मुनि के आश्रम में रहता था कहीं आसपास उसके आश्रम के पास ही रहता था तो एक दिन बिल्ली उसके पीछे पड़ गई खाने को वो भाग आया और ऋषि को जाके बोला हे ऋषि जी मेरी बिल्ली से रक्षा करो ये बिल्ली मुझे मारती है उन्होंने कहा ठीक है तू बिल्ली बन जा और वो बिल्ली बन गया चूहा जो बिल्ली बन गया अब दोनों बिल्ली बन गए तो बराबर के हो गए तो अब वो उसको नहीं मार सकती थी तो बिल्ली बन के रहने लगा फिर कुछ दिनों में फिर एक कुत्ता आया उस कुत्ते ने बिल्ली पे हमला किया तो बिल्ली भागी आई चूहा जो बिल्ली बन गया था फिर भागा आके गुरु जी मुझे बचाओ ये कुत्ता मुझे काटता है उसने कहा तो कुत्ता बन जा तो वो कुत्ता बन गया फिर बराबर हो गए फिर कुछ दिन बाद भेड़िया आया तो उसने भेड़िया ने हमला किया तो उसने कहा तू भेड़िया बन जा फिर भेड़िए के ऊपर एक शेर ने हमला किया तो फिर उसको कहा तू शेर बन जा तो चूहे से वो शेर बन गया बदलते बदलते उसकी वाणी अमोक थी जो कहता था वही हो जाता फिर क्या हुआ जब वो शेर बन गया तो उसने देखा अब मैं ताकतवर हूं अब मुझे कोई नहीं मार सकता ठीक है और ये जो ऋषि है जिसने मुझे चूहे से शेर बनाया इसकी वाणी में ताकत है और ये जो है इसके ऊपर कब्जा करना चाहिए ये ये तो कुछ भी कर सकता तो मैं क्या करता हूं इसी को मार के खा जाता हूं बस फिर मेरे लिए कोई समस्या बचेगी नहीं कोई मुझे दबाने डराने वाला बचेगा नहीं फिर मैं मजे से जीऊंगा तो ये जब उसके मन में विचार आया तो ऋषि ने उसकी तपस्या से अपने जान लिया कि इसके मन में तो ऐसा विचार आया तो मुझे ही मारेगा <laughs> इसको मैंने चूहे से शेर बनाया इसकी जान बचाई है तो मेरी जान लेने को तैयार है तो ये ठीक नहीं है इसको वापस चूहा बना दो और उसको कहा तू वापस चूहा बन जा और वो शेर वापस चूहा बन गया तो उसकी वाणी अमोघ होती है वो चूहे को शेर बना दे शेर को चूहा बना दे ऐसी कथा आती है पर ये झूठ है ऐसा नहीं होता चूहा बिल्ली नहीं बनता बिनता बिल्ली कुत्ता नहीं बनती कुत्ता भेड़िया नहीं बनेगा भेड़िया शेर नहीं बनेगा किसी के कहने से कुछ नहीं होगा तो प्रकार से जो लोग अर्थ करते हैं वो गलत है ऐसा नहीं होगा तो जो भी कहेगा परीक्षा पूर्वक कहेगा सच कहेगा इसलिए इस अर्थ में उसकी वाणी बेकार नहीं जाती ठीक है जी आगे चले अगला सूत्र है सैतीस बोलिए अस्तेय अस्तेय प्रतिष्ठायाम प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न सर्वरत्न उपस्थानम उपस्थानम अस्तेय का जीवन में पालन करने पर अस्तेय का जो पालन करता है जरा भी चोरी नहीं करता जरा भी हेराफेरी नहीं करता जरा भी बेईमानी नहीं करता किसी की चीज को ऐसे हाथ नहीं लगाता बिना पूछे जो भी वस्तु चाहिए पूछ के प्रयोग करता है जो इस तरह से पूरा पालन करता है अस्तेय का उसको क्या फल मिलता है सर्व रत्न उपस्थान सर्व सब प्रकार के रत्न का मतलब है उत्तम उत्तम पदार्थ सब प्रकार की अच्छी अच्छी चीजें उपस्थानम उसको उपस्थित हो जाती है प्राप्त हो जाती है उसको सब अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं कोई कमी नहीं रहती किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती ये उसको लाभ होता है क्यों होता है ये लाभ इसलिए कि वो ईमानदार है उसके घर के लोग परिवार के लोग समाज के लोग बुद्धिमान लोग वो उसकी पहचान करते हैं कि ये ईमानदार है छीना झपटी नहीं करता किसी का छीनता नहीं खाता नहीं सीधा साधा है बेचारा तो ऐसा ना हो ये बेचारा ऐसे कमजोर रह जाए इसको खाने को ही नहीं मिले तो इसको पहले सुविधा देनी चाहिए उसके प्रति लोगों की सहानुभूति होती है और लोग उसकी पूरी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं उसको हर चीज बढ़िया बढ़िया ला देते हैं और पहले उसको ला देते हैं बाद में दूसरों को देते हैं तो कितना अच्छा लाभ हुआ अस्तेय का पालन करने से सब कुछ मिलता है बढ़िया बढ़िया मिलता है अच्छा अच्छा मिलता है इस बात को हम एक दृष्टांत से समझ लेंगे मान लीजिए एक घर में चार बच्चे हैं चार बच्चे हैं तो चार में से तीन बच्चे ऐसे हैं जो छीन झपट के खा जाते हैं जो भी अच्छी चीज आती है घर में मिठाई उठाई और जो भी कोई फल वल तो देखते हैं हाँ वहां रखा है फट उठा के खा जाते हैं तीन तो ऐसे गड़बड़ वाले एक बच्चा सीधा साधा है वो ऐसा नहीं करता उसको माँ जो दे देगी वो खा लेगा नहीं देगी तो नहीं खाएगा वो सीधा साधा बैठा रहता उसका ऐसा अभ्यास है तो वो अस्तेय का पालन कर रहा है बिना पूछे खाता नहीं उठा के खाता नहीं छीन झपट के खाता नहीं दूसरा खा रहा उसका छीनता नहीं ऐसी बात है आप देखेंगे घर में कोई मिठाई आएगी कोई फल आएगा कोई और अच्छी चीज आएगी पिताजी लाएंगे तो रख देंगे रसोई में तो माँ क्या करेगी वो जो एक सीधा साधा है ना पहले उसके लिए छुपा के रखेगी <laughs> ये तो छीन झपट के खा जाएंगे तीन वो बेचारा रह जाएगा तो पहले उसके लिए सुरक्षित रखो और फिर जो बचेगा ये खाते रहेंगे अब बताइए उसको क्या घाटा हुआ कोई घाटा नहीं है फायदा ही है ना उसकी सुरक्षा पहले ही हो जाती है ये ईमानदारी का लाभ है तो ऐसे ही जो व्यक्ति समाज में ईमानदारी से काम करता है छीना झपटी नहीं करता लोग उसका परीक्षण करते हैं सब व्यक्ति एक दूसरे का परीक्षण करते हैं बोलिए सब व्यक्ति एक दूसरे का परीक्षण करते हैं हाँ इस सिद्धांत को हमेशा याद रखो जब तक व्यक्ति जिएगा जब तक उसकी आंख खुली है जब तक उसकी बुद्धि ठीक चल रही है वो दूसरे का परीक्षण करेगा बिना परीक्षण किए वो एक मिनट भी नहीं जीता जो भी चीज सामने आएगी उसका परीक्षण करेगा जड़ हो या चेतन कोई भी चीज हो जीवात्मा का ये स्वभाव है वो जिज्ञासु है वो जानना चाहता है कौन सी वस्तु कैसी है इसमें क्या लाभ है क्या हानि है लाभ होता हो तो ले लो हानि होती हो तो बचो उसका ही स्वभाव है तो जड़ वस्तु आएगी उसका भी परीक्षण करेगा अच्छा ये नई मशीन आई नहीं समझ में तो उससे पूछा भाई बताओ ये क्या चीज है थोड़ा मुझे बताओ इसका क्या फायदा है अच्छी हो काम की तो मैं भी खरीद लू तो इस तरह से वो हर चीज को जानना चाहता है और चेतन हो तो उसका भी परीक्षण करता है कि आदमी ठीक है या खराब है अच्छा आदमी है तो दोस्ती रखेंगे कुछ लाभ ले लेंगे और ये गड़बड़ आदमी है तो जरा बच के रहेंगे कभी हमारी जेब ना काट ले नुकसान ना कर दे इस तरह से परीक्षण चलता रहता है हर व्यक्ति करता है छोटा बच्चा भी परीक्षण करता है बड़ा भी करता है जब तक बुद्धि चल रही है तब तक परीक्षण चलता रहेगा वो बंद नहीं होता है दो साल का बच्चा भी परीक्षण करता है जनता क्या समझती है ये तो छोटा बच्चा है ये क्या समझेगा ऐसा नहीं वो भी समझता है जितनी उसकी बुद्धि है वो उतना समझता है जितना उसका लेवल है आईक्यू लेवल है वो उतना समझता है वो आप जैसा बड़ा नहीं समझ पाएगा पर जितना है उतना तो समझेगा वो आप किसी घर में जाइए कोई छोटा बच्चा मिलेगा आप उससे कहेंगे बेटा नमस्ते करो वो नमस्ते नहीं करेगा आप कहेंगे अच्छा लो तुम्हें चॉकलेट देता हूं एक चॉकलेट निकालो जेब से और उसको चॉकलेट दिखाओ तो फट से नमस्ते कर ले उसने परीक्षा कर ली ना आपकी ये चॉकलेट खिलाता है अच्छा आदमी है <laughs> ये अच्छा आदमी हमारे काम का है चॉकलेट खिलाता है तो वो नमस्ते तुरंत कर देगा उसने आपकी परीक्षा कर ली और आपने उसको कहा बेटा नमस्ते करो और उसने नमस्ते नहीं की आपने चॉकलेट तो दी नहीं उल्टा डांट लगा दी है न लाए नमस्ते नहीं करता इतना भी नहीं सीखा अब तक घर में कोई मेहमान आए तो नमस्ते करना चाहिए आपने ऐसे डांट दिया तो भाग जाएगा <laughs> उसने परीक्षा कर ली बेकार आदमी है <laughs> इससे बच के रहो बेकार आदमी वो तो चॉकलेट से ही परीक्षा करना जानता है जो चॉकलेट खिलाएगा वो ठीक है जो डांट लगाएगा वो बेकार है भाग जाएगा वहां से तो वो भी समझता है ऐसी बात नहीं उससे आप प्रेम से बात करो उसके स्तर की बात करो खुश हो जाएगा वो आपको अच्छा आदमी समझेगा वो नहीं जानता आप पीएचडी हैं साइंटिस्ट हैं इंजीनियर हैं पायलट हैं क्या है वो ये नहीं जानता वो इतना जानता है ये मेरे काम का है बस तो इस तरह से हर व्यक्ति दूसरे का परीक्षण करता रहता है और जब वो दूसरा व्यक्ति देखता है ये ईमानदार है चोरी नहीं करता झूठ नहीं बोलता हेरा फेरी नहीं करता कुछ नहीं करता तो उसके प्रति सहानुभूति उत्पन्न होती है सहयोग की भावना उत्पन्न होती है इस कारण से समाज के लोग उसको सहयोग देते हैं और उसको सारी अच्छी अच्छी चीजें देते हैं कपड़ा चाहिए तो बढ़िया कपड़ा देंगे बिस्तर चाहिए तो बढ़िया बिस्तर देंगे भोजन चाहिए तो बढ़िया भोजन खिलाएंगे खुद हल्का खा लेंगे उसको अच्छा खिलाएंगे तो इस प्रकार से अस्तेय का पालन करने से ये सब प्रकार का लाभ होता है अब लोग क्या समझते हैं भाष्य पढ़िए फिर बताता हूं सर्वधिक सर्वधिक क्या लिखा है सर्व स्थान दिक स्थानी स्थानी अस्य अस्य उपतिष्ठन्ते उपतिष्ठन्ते रत्नानी रत्नानी हम्म, देखो राशि में विचित्र विचित्र बात लिखी है तो लोग इसलिए भ्रांति में पढ़ते हैं तो भाषा में लिखा है दिक स्थानी सब दिशाओं में विद्यमान स्थित रत्नानी हीरे मोती सोने चांदी हीरे जवाहरात ही जो भी रखे होते हैं अलग अलग दिशाओं में कोई किसी सेठ की तिजोरी में रखा है कोई पूर्व दिशा में रखा है कोई पश्चिम दिशा में रखा है तो सारी दिशाओं में रखे हुए बड़े बड़े हीरे मोती रत्न जवाहरात सोना चांदी उसके सामने हवा में उड़ते हुए उपस्थित हो जाते हैं <laughs> हवा में उड़ उड़ के आते हैं और उसके सामने वो उपस्थित हो जाते हैं लोग ऐसा अर्थ करते हैं ये तो गलत है ऐसे थोड़ी आ जाएगा कोई तो इसका भाव यही था कि चारों ओर से सभी लोग उसको अच्छी अच्छी वस्तुएं भेंट देते गिफ्ट में लाके देते आपको फोन चाहिए तो फोन लाके देंगे जूता चाहिए देखा जूता फट गया गुरु जी बढ़िया जूता दिलाएंगे एक्शन का और भी जो कंपनी होती होगी <laughs> बाटा का एक्शन का जो भी लखानी का बढ़िया जूता दिलाएंगे और ठंडी आ रही है और ठंड पड़ रही है गुरु जी का शॉल फट गई है कंबल फट गया है तो बढ़िया नया कंबल दिलाएंगे नई शॉल दिलाएंगे अच्छी वाली क्वालिटी फिर देखेंगे अच्छा गुरु जी यात्रा बहुत करते हैं बहुत मेहनत करते हैं चलो इनको थोड़ा बादाम खिलाओ हम्म। तो अच्छे अच्छे बादाम ला के देंगे कोई काजू ला के देगा कोई पिस्ते ला के देगा कोई बढ़िया एसी का टिकट निकाल के देगा कोई फ्लाइट का टिकट देगा तो क्या कमी है उसको सब तरफ से सारी अच्छी अच्छी चीज मिलती कोई समस्या नहीं तो ये इसका अभिप्राय ऐसा जानना चाहिए हवा में उड़ता हुए कोई चीज नहीं आएगी उसके हो गया अस्त्य का फल आगे पढ़ते हैं चौथा है ब्रह्मचर्य उसका फल है अड़तीसवें सूत्र में बोलिए ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम प्रतिष्ठायाम वीर लाभ सूत्रार्थ है ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा होने पर वीर का लाभ होता है वीर्य का मतलब है बल शक्ति दो प्रकार की शक्ति बढ़ती है एक शारीरिक बल एक बौद्धिक बल दोनों प्रकार का बल उसका बढ़ता है जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है उदाहरण देखना हो तो महर्षि दयानंद जी के जीवन में देख सकते उदाहरण तो अच्छा ऊंचा देखना चाहिए ताकि पता तो चले हाँ इसका पालन करने से क्या लाभ होता है तो बहुत सारी घटनाएं उनकी आप जानते हैं एक कोई पंजाब के राजा विक्रम सिंह जी थे किसी इलाके के विक्रम सिंह थे राजा तो वहां स्वामी दयानंद जी प्रवचन दे रहे थे ब्रह्मचर्य की बात कर रहे थे तो राजा विक्रम सिंह जी ने कहा कि स्वामी जी आप बहुत ब्रह्मचर्य की बात करते हैं ब्रह्मचर्य में बल होता है कोई अपना चमत्कार दिखाओ तो सही क्या बल होता है ब्रह्मचर्य में तो उन्होंने कहा ठीक है कभी दिखाएंगे अवसर आएगा तब दिखा देंगे तो बात खत्म हो गई तो कथा वथा समाप्त हो गई वो जाने लगे तो राजा विक्रम सिंह अपनी बग्घी में बैठे उसमें दो घोड़े थे आगे तो कोचवान ने ड्राइवर ने बग्घी चलाई और वो चले नहीं खूब अंठर मारे घोड़ों को घोड़े हिले ही नहीं तो उसने देखा भाई क्या बात है ये घोड़े चलते क्यों नहीं बग्घी आगे सरकती क्यों नहीं तो राजा विक्रम सिंह जी ने पीछे मुड़ के देखा अरे कौशल्यानंद जी ने उसका एक पहिया पकड़ रखा था बग्घी का तो फिर समझ में आया कि क्यों नहीं चल रहे बग्घी में घोड़े और बग्घी क्यों नहीं चल रहे अब पता चला तो जब देखा अच्छा महर्षि दयानंद जी ने बग्घी का पहिया पकड़ रखा है फिर उतर के नीचे आए और पांव छू के नमस्ते की और बोला गुरु जी समझ में आ गया ब्रह्मचर्य में क्या बल होता है <laughs> तो ऐसी उनके जीवन की बहुत सी घटनाएं मिलती हैं बार पहलवान लोग आए उनसे टक्कर लेना एक पहलवान ने कहा अच्छा बाबा तुम अपने आप को बहुत पहलवान समझते हो चलो अखाड़े में देखते हैं कितनी ताकत तो उन्होंने देखा ये नियत खराब है इसकी फालतू लड़ाई झगड़ा करेगा इससे टकराने की कोई जरूरत नहीं है इसको वैसे ही छुट्टी कर देंगे दूसरे तरीके से तो जैसा इतिहासकार बताते हैं उसके अनुसार महर्षि दयानंद जी ने कहा अच्छा ठीक है तुम बहुत ज्यादा बलवान समझते हो अखाड़े में तो बाद में उतरेंगे पहले एक काम करो उन्होंने एक अपनी लंगोटी जो एक्स्ट्रा थी उसको पानी में भिगोया और उसको निचोड़ दिया और कहा लो इस लंगोटी में से पानी निकाल के दिखाओ फिर अखाड़े में चलते तो उसने बहुत जोर लगाया पहलवान ने <laughs> पानी नहीं निकला कुछ नहीं निकला तो उससे जब नहीं निकला तो स्वामी दयानंद जी ने कहा लाओ मुझे दो फिर उन्होंने लगोटी ली और फिर निचोड़ी तो उसमें से पानी निकल आया बोला अब चलो अखाड़े में अब देखते हैं नमस्ते माफ करो वहीं से भाग गया हो तो ऐसे ऐसे बहुत सारे किस्से आते हैं एक बार राजस्थान के एक राजा थे राव करण सिंह जिन्होंने तलवार निकाल ली थी कोई बात में गर्मा गर्मी होगी गुस्सा आ गया राजा को उन्होंने स्वामी दयान को मारने के लिए तलवार खींच ली तो उन्होंने देखा ये तो गड़ासी दयान जी ने तलवार छीन ली और जमीन पर रख के ऐसे तोड़ दी उसके टुकड़े कर दिए लोहे की तलवार तोड़ दी तो वो बेचारा पसीना आ गया राजा को इतना डर गया वो कि आदमी क्या है लोहे की तलवार तोड़ सकता है तो मेरी हड्डियों का तो सुरमा बना देगा <laughs> वो बेचारा बहुत घबराया उसने हाथ जोड़ लिए तो ऐसी ऐसी बहुत सी घटनाएं आती हैं जिससे पता चलता है ब्रह्मचर्य का पालन करने से कितना बल मिलता है शक्ति आती है दूसरा बल है बुद्धि का वो तो आप जानते हैं कितने ही शास्त्रार्थ हुए कहीं भी नहीं आ रहे कितने ही पंडित सत्ताईस सत्ताईस पंडित एक तरफ और वो अकेले एक तरफ काशी में शास्त्रार्थ हुए कई तो फिर भी वो जीत गए और सत्ताईस पंडित हार गए उनसे तो ये बुद्धि का बल बढ़ता है ये ब्रह्मचर्य का पालन करने से बढ़ता है तो ऐसे ऐसे महाभारत आदि में भी बहुत सारे गुण लिखे हैं ब्रह्मचर्य का पालन करने से क्या क्या गुण मिलते हैं व्यवहार वालों में श्लोक दे रखा है दोनों तरह का बल बढ़ता है ये इसका लाभ है अब भाष्य में देखिए क्या लिखा है भाष्य में लिखा है यस्य लाभात यस्य लाभात अप्रतिघान गुणान गुणान उत्कर्षयति उत्कर्षयति सिद्धश्च सिद्धश्च विनेशु विनेशु ज्ञानम ज्ञानम आधातुम आधातुम समर्थो समर्थो भवती यस्य लाभात जिस बल की प्राप्ति होने से लभ प्राप्त हो प्राप्ति होने से तो दोनों तरह का बल प्राप्त हुआ शारीरिक बल और बौद्धिक बल दोनों तरह का बल प्राप्त होने से अप्रतिघान गुणान उत्कर्ष न दबने वाले गुणों का वो विकास कर लेता है मतलब ऐसे गुणों का विकास कर लेता है जो कभी दबते नहीं किसी से हारते नहीं उसके अंदर विशेष कलाएं विशेष योग्यताएं ऊहा बुद्धि चातुर्य आदि आदि ये सब गुण उसमें विकसित हो जाते हैं इतने बढ़िया हो जाते हैं वो किसी से घबराता नहीं किसी से डरता नहीं किसी से दबता नहीं कोई उसको डरा नहीं सकता डरा नहीं सकता धमका नहीं सकता दबा नहीं सकता इतना उत्कर्ष होता है व्यक्ति का इतना विकास होता है इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए फिर कहते हैं सिद्धश्च इस प्रकार से अनेक योग्यताओं से सिद्ध होकर युक्त होकर के ठीक है विनय येशु जो उसके विद्यार्थी होते हैं पढ़ने वाले विनय पूर्वक नम्रता पूर्वक जो आकर के पढ़ना चाहते हैं उन विद्यार्थियों को ज्ञानम आधातुम समर्थ भवती उनमें वो सारा ज्ञान स्थापित करने में समर्थ होता है मतलब पढ़ाने सिखाने की कला भी उसकी बढ़िया होती है क्योंकि बुद्धि का विकास हुआ ना तो बहुत खोजबीन करता है रिसर्च करता है टेक्निक डेवलप करता है और फिर बढ़िया बढ़िया टेक्निक से विद्यार्थियों को फटाफट बुद्धिमान बना देता है इतनी उसकी योग्यता बनती है तो इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए उससे सब प्रकार का लाभ है शरीर स्वस्थ रहता है आयु बढ़ती है रोगों से व्यक्ति बचा रहता है उसकी बॉडी की रेजिस्टेंस पावर भी अच्छी होती है जल्दी से कोई रोग का आक्रमण नहीं होता हो जाए तो फटाफट ठीक हो जाता है उसकी बॉडी में हीलिंग पावर ज्यादा होती है दूसरा आदमी पंद्रह दिन में ठीक होगा या छह दिन में ठीक हो जाएगा उसकी हीलिंग पावर फास्ट होती है ऐसे ऐसे बहुत सारे लाभ होते हैं तो ये हुआ ब्रह्मचर्य का लाभ उनतालीसवां सूत्र अपरिग्रह अपरिग्रह स्थैर्य स्थैर्य जन्म कथनता जन्म कथनता संबोध संबोध पांचवा जो यम है अपरिग्रह उसका फल बताते हैं अपरिग्रह की स्थिरता होने पर स्थैर्य जीवन में अपरिग्रह की स्थिरता होगी अपरिग्रह का मतलब था कि आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना उसको जितना चाहिए बस उतना ही सामान रखता है पैसा हो सोना हो चांदी हो मकान हो मोटर गाड़ी जो भी चीज हो जितनी जरूरत है उतनी रखता है कपड़े जूते चप्पल बर्तन बिस्तर उतना ही रखता है फालतू नहीं रखता लोग कहते हैं भाई तू फलता सारी दुनिया कमा रही तू पैसे नहीं कमाता मूर्ख है लोग ऐसा कहते हैं वो कहता है तुम मुझे जो भी समझो समझते रहो पर मैं जानता हूं मैं क्या हूं तो जो निकट के व्यक्ति होते हैं क्लोज फ्रेंड्स वो पूछते हैं तू और पैसे क्यों नहीं कमाता सब लोग कमा रहे वो कहता है लोग जो कमा रहे हैं वो सर पे बांध के ले जाएंगे जितना चाहिए उतना तो है मेरे पास इतना पैसा है मैं जीवन भर बैठ के खा सकता हूं फिर फालतू फालतू समय क्यों बर्बाद करो मैं अपना समय बचाऊंगा क्या करोगे समय बचा कर मैं ये बचा करके ये जानना चाहता हूं कि ये मैं हूं कौन तुम पैसे क्यों जमा कर रहे हो मैं क्यों नहीं जमा कर रहा मैं इसलिए नहीं जमा कर रहा कि मेरे मन में ये प्रश्न उठता है कि मैं शरीर हूं या आत्मा हूं पैसे जमा करके क्या करूंगा सब यहीं रह जाएंगे जब मैं मरूंगा ये शरीर तो मर जाएगा और यदि मैं आत्मा हूं तो ये शरीर छूट करके फिर तो मेरा अगला जन्म होगा जब मैं अगले जन्म में जाऊंगा तो ये संपत्ति तो साथ जाएगी नहीं जब ये साथ में नहीं जाएगी तो क्यों जमा करो मेरे मन में ये सवाल उठता है अगर तुम सोचते नहीं तुम ये सोचते ही नहीं कि मरना पड़ेगा संपत्ति छोड़नी पड़ेगी इसलिए तुम अंधाधुंध कमाए जा रहे हो पर मैं ऐसे नहीं चलता मैं बुद्धि से काम करता हूं इसलिए मेरे सामने ये सवाल उठता है तो मैं ये जानना चाहता हूं मैं कौन हूं कहां से आया कहां जाऊंगा ये शरीर क्या है आत्मा क्या है परमात्मा क्या है तो ये सारी चीजें जानने की उसके मन में इच्छा तीव्र हो जाती है जन्म कथनता संबोधा इसका अर्थ है जन्म के विषय में जानने की उसकी इच्छा तीव्र हो जाती है न कि उसको अगले पिछले सब जन्मों का पता चल जाता है अगले पिछले जन्मों का पता नहीं चलता लोग इसका ऐसा अर्थ करते हैं कि हम पिछले जन्म में क्या थे अगले जन्म में कहा जन्म लेंगे कहा क्या बन जाएंगे पशु बनेंगे मनुष्य बनेंगे जापान में जाएंगे रूस में जाएंगे कहां जाएंगे उसको सब पता चल जाता है ये अर्थ गलत है ऐसा नहीं भाष्य पढ़ेंगे तो पता चलेगा भाष्य में इसको और थोड़ा स्पष्ट किया है तो सूत्रार्थ ये हुआ कि अपरिग्रह की स्थिरता होने पर जन्म कैसा है इस विषय में जानने की इच्छा तीव्र हो जाती है ये सूत्रार्थ हुआ अब भाष्य को देखिए अस्य भवती अस्य भवती जो अपरिग्रह की स्थिरता करेगा जो अपरिग्रह का पालन करेगा उसकी इच्छा तीव्र हो जाएगी किस बात की को अहम आसम को अहम आसम कथम अहम आसम कथम अहम आसम किम सिद्ध इदम किम स्विद इदम कथम स्वेद इदम कथम स्विद इदम के वा भविष्याम के वा भविष्याम कथम वा भविष्याम कथम वा भविष्याम इति एवं इति एवं अस्य अस्य पूर्वांत पूर्वांत परांत परांत मध्येषु मध्येषु आत्मभाव आत्मभाव जिज्ञासा जिज्ञासा स्वरूपेण स्वरूपेण उपावर्तते उपावर्तते एता एता यमस्य यमस्य यमस्थैर्य यमस्थैर्य सिद्धय सिद्धय तो अपरिग्रह का पालन करने पर बताते हैं कि को अहम आसम मैं कौन था पिछले जन्म में मनुष्य था पशु पक्षी था था आदि आदि इस विषय को जानने की इच्छा होती है मैं कौन था कथम अहम आसम मैं किस रूप में था अर्थात मनुष्य था या पशु था या पक्षी था और को अहम मैं मनुष्य मैं शरीर था या आत्मा था क्या था को अहम का मतलब मैं शरीर हूं या आत्मा हूं और कथम का मतलब मैं मनुष्य था या पशु पक्षी था किस रूप में था किम स्वीदम ये शरीर क्या है इदम शरीरम किम ये शरीर क्या चीज है क्या शरीर ही मैं हूं या मैं शरीर से अलग हूं इस प्रकार के प्रश्न उसके मन में उठते हैं कथम सुदिदम ये शरीर कैसा है ये धर्मार्थ मोक्ष की प्राप्ति कराएगा नहीं कराएगा या रोगी होकर दुखी देता रहेगा या कुछ सुख दिलाएगा कहीं पहुंचाएगा नहीं पहुंचाएगा ये क्या है तो आदि आदि इस बारे में जानने की इच्छा होती है के वा भविष्य अब मरने के बाद हम आगे क्या बन जाएंगे हम्म। कौन सा जन्म मिलेगा आदि आदि कथम व भविष्य में किस रूप में होंगे हम्म, मनुष्य बनेंगे पशु बनेंगे भारत में जन्म लेंगे विदेश में लेंगे कहा जाएंगे बहुत लोगों को ये टेंशन रहती है कि अरे पता नहीं हमारा अगला जन्म कैसा होगा <laughs> अरे होगा कैसा जो आप कर्म करते हैं वैसा होगा आपके हाथ में अगला जन्म लेना <laughs> अपने कर्म करना आपके हाथ में तो जैसे कर्म होंगे वैसा फल मिलेगा फिर चिंता का आएगी टेंशन का आएगी अपने कर्मों को ठीक करो आपका भविष्य आपका सुरक्षित है आपका जन्म बढ़िया है सुरक्षित है वो आपके हाथ में क्या बनना है तो आदि आदि इन बातों को जानने की उसकी इच्छा होती है इति एवं इस प्रकार से अस्य इस व्यक्ति की जो अपरिग्रह का पालन करता है उसकी पूर्वांत परांत मध्येशु पूर्व जन्म अगला जन्म और मध्य जन्म ये बीच वाला जन्म इन तीनों जन्मों के बारे में आत्मभाव जिज्ञासा देखो जिज्ञासा लिखा है आत्मा को जानने की इच्छा कि आत्मा क्या है कौन है कैसे जन्म लेती है छोटा है लंबा है आत्मा परमात्मा एक ही है या अलग अलग है कर्मफल भोगता है नहीं भोगता है न्याय होता है नहीं होता है आदि आदि ये सब आत्मा के बारे में जानने की जो इच्छा है स्वरूपेण है वो उसके अंदर स्वरूप से उत्पन्न हो जाती है तो इच्छा पैदा होती है अगर हम अंधाधुंध जमा ही करते जाए पैसे ही कमाते जाएं और ये कभी सोचे ही नहीं कि मरने के बाद कोई दूसरा जन्म भी होगा अगर ये वहां सोचेंगे ही नहीं तो बस अंधाधुंध कमाते जाएंगे जैसे दुनिया कमा रही मैंने बताया था पचानवे साल का बुढा व्यक्ति देखा मैंने जो ब्याज में पैसे देता अभी भी बताओ उसको समझ में नहीं आ रहा कि अगला जन्म होगा नहीं होगा क्या होगा ये सारे पैसे सर पे बांध के ले जाएगा अस्सी साल की उम्र में उसको दुकान पर बैठे देखा मैंने व्यापार कर रहे हैं बताओ अस्सी साल में जो व्यक्ति इस तरह से अपरिग्रह का पालन करता है उसको ये बातें उठती है मन में और वो जानना चाहता है अब यदि जानना चाहेगा तो फिर कुछ हाथ पैर मारेगा कोई दुकान कोई विद्वान ढूंढेगा कोई पुस्तक ढूंढेगा उसको पढ़ेगा किसी के पास जाएगा पूछेगा भाई बताओ मुझे समझाओ ये क्या चक्कर है अगला जन्म होगा नहीं होगा स्वर्ग क्या है नरक क्या है बंधन क्या मुक्ति क्या ये सब जानने की इच्छा होगी उसकी तो अध्यात्म में उसकी प्रगति होगी जो हाथ पैर मारेगा उसकी प्रगति होगी तो इस प्रकार से ये सारी यम की स्थिरता होने पर सिद्धियां बताई गई पांच यमों का पालन करेंगे तो ये सारे सिद्धियां उपलब्धियां अचीवमेंट्स होगी ये यमों का फल पूरा हुआ ठीक है कोई प्रश्न तो बोलिए तो ये अंतिम पद के सभी यमों का फल बता रही है ये पांचों का बता दिया ना यहाँ तक अच्छा, ये पांचों तक के हाँ, हाँ। उपसंहार किया पांच फल बता करके उसका अंतिम उपसंहार किया योग का एक अंग पूरा हो गया यम तो ये यमों के फल क्या क्या है वो कंप्लीट हुए आगे नियमों का चलेगा चलिए आगे चालीसवें सूत्र की भूमिका नियमेशु नियमेशु वक्ष्याम वक्ष्याम अब नियमों में फल बताएंगे नियमों के फल बताएंगे यम एक अंग पूरा हो गया अब दूसरा अंग शुरू होता है नियम पांच नियम है उन नियमों का पालन करने से क्या क्या लाभ होता है अब वो बताया जाएगा चालीसवा सूत्र बोलिए शौचात शौचात स्वांग जुगुप्सा स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्ग परैर संसर्ग कहते हैं शौच करने से शुद्धि करने से स्व अंग जुगुप्सा अपने ही शरीर से घृणा हो जाती है अपने ही शरीर में रुचि नहीं रहती और परईरा संसर्ग दूसरों में भी संसर्ग की इच्छा नहीं रहती क्योंकि शरीर अशुद्ध है अब यूं तो शरीर सबका अशुद्ध है और सारे रोज नहाना धोना करते ही पर सबको ये फल नहीं मिलता न तो अपने शरीर से घृणा होती न दूसरों से घृणा होती तो क्यों नहीं फल मिलता और यहां फिर क्यों बता रहे हैं कि ऐसा करने से फल मिलता है तो इसका अभिप्राय यह है कि जो व्यक्ति शुद्धि करता है ध्यान से शुद्धि करता है और शुद्धि पर ध्यान देता है और चिंतन करता है ये रोज टॉयलेट जाना पड़ता है रोज ब्रश करना पड़ता है रोज आंख कान की सफाई करनी पड़ती है, है? रोज नाक में तेल लगाओ कान में वो लगाओ तेल डालो आंख में अंजन करो और नहाना धोना करो ये ये रोज का काम है ये क्या चक्कर है ये क्या कचरा पेटी है रोज कचरा निकलता ही रहता है ऐसे ऐसे जो विचार करता है तो उसको फिर घृणा हो जाती है उसको समझ में आ जाता है कि ये ठीक नहीं है शरीर उसको ये लाभ होता है जो ध्यान नहीं देता वो उसको नॉर्मल समझता है बस नहाया धोया खाया पिया चलो पार्टी में चलते हैं वहां डांस करेंगे उसको अपना भी शरीर अच्छा दिखता है और दूसरे का भी तो उसको ये लाभ नहीं होता ध्यान देने पर लाभ होता है भाष्य स्वांगे स्वांगे जुगुप्सायाम जुगुप्सायाम शौचम शौचम आरभमाण आरभमाण काय काय अवध्य अवध्य दर्शी दर्शी काय काय अनभिष्वंगी अनभिष्वंगी यतिर्भवती यतिर्भवती कहते हैं स्वांगे जुगुप्सायाम शौचम आरभमाण अपने अंगों में शरीर में शौच करता हुआ शुद्धि करता हुआ कायावद्य दर्शी शरीर के दोष देखने वाला चौबीस घंटे सांस लेना पड़ता है अशुद्ध वायु बाहर जाती है शुद्ध वायु अंदर जाती है ऐसे ऐसे वो ध्यान देता है विचार करता है तो काय के शरीर के दोष देखता हुआ काय अनभिष्वंगी शरीर में आसक्ति हीन होकर रुचि न रखने वाला जुगुप्सायाम प्राप्त होती वो जुगुप्सा में थोड़ा घृणा में आ जाता है उससे उसको अच्छा नहीं लगता थोड़ा उससे विरक्ति सी होती है इस प्रकार से वो यतिर भवती वो संयम हो जाता है कि संयम रखो शरीर अशुद्ध है इसमें क्या रुचि रखनी ये तो मजबूरी है हमको जीना पड़ता है तो कुछ ना कुछ तो सफाई करनी पड़ेगी नहीं करेंगे तो रोगी हो जाएंगे उम्र घट जाएगी जल्दी मर जाएंगे परेशानी होगी इसलिए चलो ठीक ठाक जीने के लिए थोड़ा साफ सफाई कर लें ऐसे वो सोचता है उसका चिंतन का स्तर इस तरह से बनता है तो जब अपने ही शरीर में उसको रुचि नहीं रहती तो फिर वो सोचता है किंच किंच परैरा संसर्ग परैरा संसर्ग तो अपने ही शरीर में रुचि नहीं रही तो दूसरों में तो क्या रहेगी उसमें भी रुचि नहीं रहती और कोई संसर्ग की इच्छा नहीं होती काय स्वभाव काय स्वभाव अवलोकी अवलोकी स्वम अपी कायम स्वम अपी कायम जिहासुर मृत जलादि ब्रिज जलादि भिर् आक्षालयन्नपि आक्षालयनपि कायशुद्धिम् कायशुद्धिम् अपश्यन् अपश्यन् कथम् कथम् परकायैः परकायैः अत्यन्तमेव अत्यन्तमेव अप्रयतैः अप्रयतैः संसृज्येत संसृज्येत यहाँ कहते हैं कि जब वो अपने शरीर की शुद्धि करता है तो काय स्वभाव अवलोकी अपने शरीर के स्वभाव को देखने वाला वो देखता है रोज ही इसमें से कचरा निकलता है जरा सी चोट लग जाती है उस पर ड्रेसिंग करो पट्टी बांधो उसको ठीक ठाक रखो कीटाणु से बचाओ डेटोल से साफ करो हर दो दिन बाद पट्टी बदलो ऐसे करो तो बहुत गड़बड़ है इस तरह से शरीर को वो दोषयुक्त देखता हुआ स्वम अपी कायम जिहासु अपनी काया को भी छोड़ देना चाहता है उसको कोई आसक्ति नहीं रहती रुचि नहीं रहती बता ये सब कचरा बैठी है जल्दी जान छूटे तो अच्छा है ऐसे उसमें रहना नहीं चाहता किस तरह से वो स्वीकार करता है विचार करता है और मृत जलादि भीर अक्षालयन अपी मिट्टी पानी आदि से साबुन से शैम्पू से आदि आदि से नहाते धोते हुए भी हर रोज इतना होते हुए भी वो काय शुद्धि अपश्यन वो देखता है फिर भी ये शरीर ठीक नहीं होता कल तो नहाए थे अच्छी तरह साबुन से शैम्पू से भी नहाए आज फिर शरीर बेकार हो गया फिर नहा के आओ थोड़ा सा धूप में निकले आधा घंटा पसीना आया फिर चलो स्नान करो तो वो देखता है रोज शुद्धि करते हैं तो वही ठीक नहीं होता क्या कर, क्या समस्या है तो जब अपना ही शरीर उसका शुद्ध नहीं हो पा रहा और उसको अपने ही शरीर में मजा नहीं आ रहा उसमें भी वो रहना नहीं चाहता तो कथम अत्यंतम एवं अप्रयत पर कायी है जो दूसरे लोग हैं वो तो इतना भी ध्यान नहीं देते शरीर शुद्धि पे है तो ऐसे जो खा लिया पी लिया बीड़ी पी ली सिगरेट पी लिया गुटखा मसाला और सब कुछ कचरा पेटी डब्बा ना रखा है जो भी है सब डालते जाते हैं शराब पीते हैं ये वो करते हैं तो उनमें तो और भी ज्यादा गंदगी अन्यों के शरीरों में तो ऐसे अशुद्ध शरीरों में कथम संसर्जिए तो उनसे कैसे संसर्ग करेगा तो उनसे वो दूर भागता है कहते नहीं नहीं ये तो कचरा पेटी है ये चलती फिरती कचरा पेटी है <laughs> शरीर चलता है ना चलता फिरता है ना तो वो देखता है तो चलते फिरती कचरा पेटी जैसे कार होती है साइलेंसर से धुआं निकलता रहता है हाँ। चलती जाती है धुआं निकलता जाता है तो ऐसे चलती फिरती है कचरा पेटी है धुआं फेंकती जाती है अशुद्धि फैलाती जाती है इससे तो दूर ही रहना अच्छा है तो आसक्ति खत्म हो जाती है ये फल अपने शरीर में भी दूसरों के में ये राग आसक्ति सब खत्म हो जाता है ये बहुत बड़ी समस्या है वो वो जब भी टेलीविजन में देखते हैं पार्टी में जाते हैं कोई प्रोग्राम में जाते हैं कोई बड़े बड़े ड्रामे होते हैं तो सब लोग अच्छे अच्छे नहा धो के बढ़िया कपड़े पहन के परफ्यूम मार के आते हैं बड़े अच्छे दिखते हैं सुंदर दिखते हैं और वो एक दूसरे को देख देख के उन पर पागल होते रहते हैं दीवाने हो जाते हैं उनके पीछे पर जो इस तरह से ध्यान देता है वो ऐसे दीवाना नहीं होता वो कहता है ये तो सब कचरा पेटी है छोड़ो इसे तो एक जो संसार की ओर भोगों की ओर जो आकर्षण है वो इसको छूट जाता है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है उसकी तो जो मन में बार बार इच्छाएं उठती हैं विचार उठते रहते हैं भोग विलास के वो सारे बच जाते हैं और उसकी एनर्जी बचती है फिर उस एनर्जी को व्यक्ति अध्यात्म में पढ़ाई में ध्यान में चिंतन में परोपकार में सेवा में इन कामों में लगा सकता है तो ये इसका बहुत बड़ा लाभ है ठीक हो गया तो शौच दो प्रकार का बताया था आंतरिक बाह्य और आंतरिक तो बाह्य शौच का फल तो ये बता दिया अब आंतरिक शुद्धि का फल बताएंगे जो अंतर अंतकरण की शुद्धि मन की शुद्धि की थी अविद्या राग द्वेश आदि से उससे क्या लाभ होता है वो आगे अगला सूत्र किंच किंच सत्व शुद्धि सत्व शुद्धि सौमनस्य सौमनस्य ऐकाग्र्य ऐकाग्र्य इंद्रिय जय इंद्रिय जय आत्मदर्शन आत्मदर्शन योग्यवाणी च योग्यवाणी च च और सूत्र की भूमिका में बताया किंच और क्या बताए और सुनो इससे और भी लाभ है दूसरा लाभ है शौच का फल का दूसरा लाभ है कि सत्व की शुद्धि होती है इससे चित्त की शुद्धि होती है क्योंकि चित्त में झाड़ू लगाई थी ना चित्त मलाना माक्षालाना कमरे में झाड़ू लगाएंगे कमरा साफ हो जाएगा छत पे झाड़ू लगाएंगे छत साफ हो जाएगी जिस जहां झाड़ू लगाएंगे वो साफ हो जाएगा तो यहां चित्त के मलों का आक्षालन किया तो चित्त की शुद्धि हो जाएगी तो यहां सत्व का अर्थ करेंगे चित्त चित्त की शुद्धि हो गई मन साफ सुथरा हो गया रज और तम का प्रभाव छूट गया और चित्त अपने सही ओरिजिनल स्वरूप में आ गया वो सत्व प्रधान है तो सत्व प्रधान हो जाएगा साफ सुथरा हो जाएगा क्या होगा सौमनस्य मन प्रसन्न होगा जब चित्त शुद्ध होता है तो मन प्रसन्न होता है चित्त मलिन होता है तो मन प्रसन्न नहीं होता चिंतित रहता है उदास रहता है टेंशन में रहता है तनावग्रस्त रहता है तो वो प्रसन्नता नहीं आती परंतु जब चित्त की शुद्धि हो जाएगी राग द्वेष को हटा देंगे मन प्रसन्न हो जाएगा और जब मन प्रसन्न होगा तभी एकाग्र हो पाएगा प्रसन्न में एकाग्रम संपद देते पहले कहा था पहले अध्याय में पहले पाद में कि जब मन प्रसन्न होता है तभी एकाग्र हो सकता है चंचल मन खिन्न मन वो एकाग्र नहीं हो सकता तो ये एकाग्रता का लाभ है फिर बताया इंद्रिय जय जब मन एकाग्र हो जाएगा तो इंद्रियां तो अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगी इंद्रियां तो मन के इशारे पर चलती तो मन को हमने कंट्रोल में कर लिया एकाग्र बना लिया तो इंद्रिया ऑटोमेटिक इसके अधीन है वो भी शांत हो जाएंगी इंद्रियों को भी जीत लेंगे अब आप बाजार में निकले और जलेबी बन रही है गरम गरम देसी घी की हलवाई के सामने हलवाई की दुकान पर और आपके सामने आ गई तो उसको देख के इच्छा हो जाएगी अगर आपने इच्छा पे कंट्रोल कर लिया नहीं खानी तो रसना इंद्रिय शोर नहीं मचाएगी वो भी शांत हो जाएगी यदि मन में इच्छा को कंट्रोल नहीं कर पाए कि बहुत इच्छा हो रही है छह महीने हो गए गर्म जलेबी नहीं खाई आज तक है और कभी लोग क्या कहते हैं गर्म गर्म जलेबी खानी चाहिए वो तो उस रोग का इलाज है <laughs> तो इस रोग में बढ़िया काम आती है कौन से रोग में बताई थी दूध और जलेबी दूध और गर्म जलेबी खानी चाहिए उससे फलाना रोग ठीक हो जाता है या शांत हो जाता है कोई ऐसा ऐसा बताया था और मान लो उसको वो भी याद आ गया उसी मौके पर जब गर्म जलेबी बन रही थी कि ये तो बहुत बढ़िया इलाज है चलो खा ही लेते अब वो इच्छा को नहीं रोक पाए तो फिर रसना इंद्री भी खूब कूदेगी वो कहेगी लाओ लाओ जल्दी करो <laughs> आज बहुत दिनों बाद मिलिए आज तो खाएंगे तो इंद्रिय जय नहीं हो पाएगा मन यदि एकाग्र है हमारे अधीन है नियंत्रण में है इच्छाओं पर कंट्रोल है तो इंद्रिया भी फटाक से हमारे अधीन हो जाएंगी उन पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं ये इसका लाभ है और क्या लाभ है आत्मदर्शन योग्यत्वानी आत्मा परमात्मा को देखने की जानने की क्षमता बढ़ जाएगी क्योंकि जब मन एकाग्र होगा शांत होगा सत्व प्रधान होगा तो बाह्य वृत्ति नहीं होगी अंतर्मुख वृत्ति बनेगी तो जब हमारी वृत्ति विचार अंतर्मुखी हो जाएगा तो हम आत्मा परमात्मा का अच्छा गहरा चिंतन कर सकते हैं बाहर की कोई चीज हमको खींच नहीं रही तो अंतर्मुख वृत्ति होके ईश्वर का परमात्मा का आत्मा का कर्मफल का पुनर्जन्म का आदि आदि इन विषयों पर अच्छी तरह शांति से चिंतन मनन कर सकते हैं और उनको जानने की योग्यता हमारी क्षमता बढ़ जाती है इस प्रकार से ये आंतरिक शुद्धि करने का लाभ है भाष्य बढ़ते भवंती वाक्य शेषा वाक्य शेषा तो ये सारे लाभ होते हैं ये सूत्र के साथ जोड़ देंगे भवंती थी वाक्य शेष सूत्र का शेष भाग ये सारे लाभ होते हैं शुचे शुचे सत्व शुद्धि सत्व शुद्धि तथा तथा सौमनस्यम सौमनस्यम तथा तथा ऐकाग्र्यम ऐकाग्र्यम तथा तथा इंद्रिय जय इंद्रिय जय तथा आत्मदर्शन आत्मदर्शन योग्यत्व योग्यत्व बुद्धिसत्वस्य बुद्धिसत्वस्य भवति शौच शौच स्थैर्यात् स्थैर्यात् अधिगम्यते अधिगम्यते कहते हैं शुचे शुद्धि करने से मन की शुद्धि करने से सत्व शुद्धि मन शुद्ध हो जाएगा चित्त की शुद्धि करेंगे चित्त साफ हो जाएगा तो चित्त ही अर्थ बनता है यहां पर तथा सौमनस्यम ये सारी बात बताई दी उससे मन प्रसन्न हो जाएगा तथा एकाग्रम उससे मन एकाग्र हो जाएगा तथा इंद्रिय जया उससे मन इंद्रियों इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाएगी मन के कंट्रोल में रहने से ततश्च आत्मदर्शन योग्यत्व बुद्धि सत्व से भवती और उससे बुद्धि सत्व का अर्थात चित्त नामक पदार्थ का योग्यता सामर्थ्य क्षमता बढ़ जाएगी आत्मा परमात्मा को जानने के लिए ये उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी इति एतत् शौचात ये सब का सब शौच करने से स्थैर्याद शौच की स्थिरता होने से अर्थात जीवन में उसका पालन करने से अधिगम्य प्राप्त होता है कहा तक वो बयालीस बोलिए संतोषात संतोषात अनुत्तम अनुत्तम सुख लाभ सुख लाभ इस सूत्र में संतोष का फल बतलाया संतोष यम नियमों में नियमों में दूसरा नियम शौच संतोष कहते हैं संतोषात संतोष का पालन करने से अनुत्तम सुख लाभ अनुत्तम सुख की प्राप्ति होती है लाभ माने प्राप्ति तो अनुत्तम शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं एक तो न न उत्तम अनुत्तम जो उत्तम नहीं है घटिया सबसे घटिया एक तो यह अर्थ हो सकता है दूसरा अर्थ यह बनता है न उत्तम अस्ति यस्मात जिससे बढ़कर और उत्तम कोई ना हो सर्वोत्तम तो यहां प्रसंगानुसार यह अर्थ लगेगा सर्वोत्तम तो संतोष का पालन करने से सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति होती है सबसे ऊंचा सुख मिलता है दुनिया में सबसे बढ़िया राशि में देखते हैं कितना अच्छा सुख मिलता है तथा चौकतम तथा चौकतम ऐसा ही किसी आचार्य ने कहा है उसका वचन उद्धृत करते हैं श्लोक है ये बोलेंगे गा करके यच्च काम सुखम लोके यच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्यम् महत्सुखम् यच्च दिव्यम् महत्सुखम् तृष्णाक्षयसुखस्यैते तृष्णाक्षयसुखस्यैते नार्हतः षोडशीम् कलाम् नार्हतः षोडशीम् कलाम् यच्च कामसुखम् लोके संसार में जो कामनाओं की पूर्ति होने से सुख मिलता है बहुत ऊंचा सुख है एक व्यक्ति सोचता था मेरा मकान हो जाए तो बस लॉटरी लग जाए मजा आ जाए और उसने अपना मकान खरीद लिया बहुत मेहनत करके पैसे कमा जमा करके मकान खरीद लिया आप देखो कितना सुख मिलता है उसको आज मेरे पास अपना मकान मैं आराम से सो सकता हूँ कोई चिंता नहीं कोई टेंशन नहीं कोई मुझे निकाल देगा भगा देगा बहुत सुख मिलता उसको फिर ऐसे ऐसे और भी उसको इच्छाएं होती जाती हैं वो कामनाएं पूरी होती जाती हैं मेरी इनकम बढ़ जाए वो भी इच्छा पूरी हो गई फिर मैं कार खरीद लू वो कार भी खरीद ली पहले छोटी कार खरीद ली फिर बड़ी कार की इच्छा होती है वो बड़ी कार भी खरीद लेता है तो ऐसे बहुत सारी इच्छाएं पूरी होती जाती हैं उन इच्छाओं की पूर्ति होने से उसको सुख मिलता है दूसरा यच्च दिव्य महत सुखम और जो बड़े बड़े दिव्य सुख होते उसको मान लो किसी पार्टी का अध्यक्ष बना दिया अब तो उसकी बहुत ऊंची स्थिति बन गई ना तो अब तो उसकी बहुत प्रशंसा होगी बहुत सम्मान मिलेगा और अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी ऊंची सभाओं में उसको बुलाएंगे वहां पर मंच पर बिठाएंगे फूलहार पहनाएंगे सम्मान करेंगे फोटो खींचेंगे फिर टेलीविजन में अखबार में भी देंगे तो बड़े बड़े लोग आएंगे उससे सम्मान से मिलेंगे बातचीत करेंगे उसको खिलाएंगे पिलाएंगे सारी सेवा करेंगे तो ये बड़े बड़े सुख भी मिलते हैं बड़े बड़े होटलों में पार्टियों में जाते हैं लोग खूब पैसे भी कमाते हैं इस प्रकार से जो बड़े बड़े सुख मिलते हैं कभी कभी मुख्यमंत्री बनने का भी सुख मिल जाता है व्यक्ति को ये दिव्यम महत सुखम के अंतर्गत आएगा कभी सीएम बनने का चांस बनने का चांस लग गया कभी प्रधानमंत्री बनने का अवसर लग गया तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े सुख भी उसको मिलते रहते हैं तो इस प्रकार से ये दोनों सुख एक परणे में रखो अपनी कामनाएं पूरी होने का सुख और बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पदों की प्राप्ति का और सम्मान का सुख ये सारा दोनों सुख मिला के एक पलड़े में और दूसरे पलड़े में कौन सा सुख तृष्ण क्षय सुख इच्छाओं के छूट जाने का नष्ट हो जाने का सुख इच्छाएं छोड़ दी नहीं चाहिए ऊंचा पद नहीं चाहिए सम्मान नहीं चाहिए धन नहीं चाहिए टेलीविजन में फोटो नहीं चाहिए अखबार में फोटो नहीं चाहिए इच्छा ही नहीं है जो इच्छाओं के पूरा होने से सुख हो रहा था यदि उन इच्छाओं को ही छोड़ दिया जाए तो कह रहे हैं उससे तो बहुत ऊंचा सुख होता है तृष्णा क्षय सुख का एते ये दोनों सुख जो एक परिणय में रखे थे ये दोनों मिलकर के भी उस तृष्णा क्षय सुख का षोडशीम कलाम न अर्हता ये उसके सोलहवें हिस्से के बराबर भी नहीं है ये दोनों सुख मिला करके इतने छोटे सुख हैं और संतोष का सुख इनसे सोलह गुना पचास गुना सौ गुना ऊंचा इसलिए सबसे ऊंचा सुख है सबसे बढ़िया सुख है संतोष का पालन करो मस्त रहो कोई चिंता नहीं कोई टेंशन नहीं मिल गया तो ठीक है नहीं मिला तो भाड़ में जाए <laughs> नहीं मिला तो ना सही उसके भी ही जी लेंगे जितना है उसका लाभ ले लेंगे है बढ़िया ऊंची बीस लाख की कार नहीं मिली तो ना सही आठ लाख की तो है आठ लाख वाली में काम चला लेंगे आठ वाली भी नहीं मिली तो छह लाख की है छह वाली में जी लेंगे चार ही तो पहिए दोनों छह लाख वाले में भी चार पहिए बीस लाख वाली कार में भी चार पहिए उल्टा उसमें टेंशन ज्यादा है बीस लाख वाली जितनी महंगी खरीदो उतनी टेंशन ज्यादा पहले तो पैसा खर्च करो बीस लाख फिर खरीद ली तो उसकी सुरक्षा करो वो टेंशन ज्यादा है आपने कार पार्क कर ली फिर वो बच्चे आएंगे लकीर मारते जाएंगे स्केचेस <laughs> मार देंगे आपको फिर दुख होगा कि हमारी बढ़िया गाड़ी बिगाड़ दी इन्होंने बच्चों ने अब बच्चों को तो समझा नहीं सकते कहां तक उनके पीछे लगे रहेंगे वो स्कूल से आएंगे अपना पत्थर उठाएंगे और कार पर रगड़ते जाएंगे <laughs> फिर कई मन चले लोग होते जानबूझ के तंग करने वाले वो पत्थर उठा के शीशा तोड़ देंगे कार का अब वो आपकी बीस लाख की कार का शीशा बदलना पड़े तो पचास हजार का तो शीशा आएगा तीस चालीस हजार का तो शीशे जाएगा तो उसकी सुरक्षा की चिंता खो जाने की चिंता टूट फूट जाने की चिंता चोरी हो जाने की चिंता बहुत सारी चिंता है तो इच्छा पूर्ति होने से उतना सुख नहीं मिलता जितना इच्छा छोड़ देने से वो सोचता है मुझे कार चाहिए नहीं जान छोटी न खरीदने का झंझट न सुरक्षा का झंझट न कोई स्क्रेचिज पड़ने की समस्या और न कोई तोड़फोड़ रिपेयरिंग की समस्या कुछ नहीं कोई समस्या ही नहीं बस में चले जाएंगे ट्रेन में चले जाएंगे टैक्सी में बैठ जाएंगे किसी और के साथ बैठ जाएंगे टाइम पास करना थोड़े दिन की बात हो जाएगा वो इच्छाएं छोड़ देता है बड़ी बड़ी बहुत सुखी हो जाता है तो ये बताते हैं इच्छाओं को छोड़ देने से संतोष का पालन करने से जो सुख मिलता है वो बहुत ऊंचा सुख है और ये सारे सुख मिलकर के उसका सोलवा हिस्सा भी नहीं इस प्रकार से संतोष का पालन करने से सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति होती है स्थित कायेन्द्रिय कायेन्द्रिय सिद्धि सिद्धि अशुद्धि क्षया तपस तपस तप का फल बता रहे तीसरा नियम तप शब्दों को उल्टे क्रम से देखिए तपस तप से तप का आचरण करने से शारीरिक मानसिक दोनों तरह की तपस्या करने से भूख प्यास गर्मी ठंडी हानि लाभ मान अपमान सुख दुख इन सब चीजों को अच्छी तरह प्रसन्नता से सहन करेंगे तो ये तप कहलाएगा ऐसा तप करने से क्या होता है अशुद्धि क्षयार्थ अशुद्धि का क्षय हो जाता है अशुद्धि नष्ट हो जाती है शरीर की मन की अशुद्धियां खत्म हो होती जाती है शरीर बलवान बनता है इस अशुद्धि का क्षय होने से अशुद्धि का क्षय होने से काय इंद्रिय सिद्धि काया शरीर इंद्रिया आंखना कान आदि ये शरीर इंद्रिया बलवान हो जाता है क्योंकि अशुद्धि हट जाती है आदमी तपस्या करता है धूप में भी जाएगा ठंडी भी सहन करेगा और भूख लगेगी वो भी सहन करेगा प्यास लगेगी वो भी सहन करेगा तो उसका शरीर में क्षमता बढ़ेगी बलवान हो जाएगा आप मजदूर को देखो सारा दिन पत्थर उठाता है ढोता है काम करता है उसका शरीर बहुत बलवान होता है और जो बैंक का मैनेजर है सारा दिन एसी में बैठा रहता है उसको एक घंटा धूप में चलना पड़ जाए तो हालत बिगड़ जाएगी और मजदूर सारा दिन खेत में धूप में काम करते रहते हैं उनको कुछ नहीं होता उनका शरीर मजबूत रहता है तो इस प्रकार से शरीर और इंद्रियों की शक्ति बढ़ती है बलवान होता है उससे क्या होता है व्यक्ति स्वतंत्र रहता है प्रसन्न रहता है चुस्त रहता है सारे काम आसानी से कर लेता है मस्त रहता है और उसकी आयु भी बढ़ती है इस प्रकार से ये तप करने का लाभ है तो तप करना चाहिए घबराना नहीं चाहिए डरना नहीं चाहिए हाँ फालतू भी नहीं करना चाहिए सीमा से करना चाहिए सीमा का अतिक्रमण करेंगे कहीं भी तो हानि होगी इसलिए अति सर्वत्र वर्जयत अति सब जगह पर नहीं करनी चाहिए सीमा से करना चाहिए सब काम आगे बढ़े निर्वर्ष के मानव एव तप एव तप हिनस्ती हिनस्ती अशुद्धि अशुद्धि आवरण आवरण मलम मलम तो कहते हैं निर्वर्त्यमानम एवं तप उत्पन्न होता हुआ तप निर्वर्त्यमानम उत्पन्न होता हुआ तप तप अर्थात जब तप उत्पन्न होता है तप किया जाता है तब अशुद्धि आवरण मलम हिनस्ती अशुद्धि के आवरण रूपी मल को वो नष्ट कर देता हिनस्ती खत्म कर देता तद आवरण मल बोलिए तद आवरण मल अपगमात् अपगमात् काय सिद्धि काय सिद्धि अणिमाद्या अणिमाद्या तो उस अशुद्धि रूपी आवरण के मल के हट जाने से काय सिद्धि शरीर की सिद्धि होती है अणिमा आदि शरीर में ये प्राप्त होती है तो ये हम ठीक नहीं मानते ये काया ये शरीर की सिद्धियां नहीं है अणिमा लघिमा महिमा जो आठ सिद्धियां बताई जाती है तो ये ठीक नहीं है हम इसका यह अर्थ करेंगे कि शरीर बलवान हो जाता है इंद्रिया मजबूत हो जाती है इतना हम सीमित अर्थ करेंगे तथा इंद्रिय सिद्धि तथा इंद्रिय सिद्धि दूरात दूरात श्रवण श्रवण दर्शनाद्या दर्शनाद्या इति ये ठीक है इंद्रिय की सिद्धि हो जाती है इंद्रिय बलवान हो जाती है दूर से व्यक्ति सुन लेता है दूर से देख लेता है अर्थात उसकी सुनने देखने की क्षमता अच्छी हो जाती है एक आदमी सौ मीटर तक देखता है तो ये सवा सौ मीटर देखेगा डेढ़ सौ मीटर देख लेगा दूर से देख लेगा थोड़ी क्षमता अच्छी हो जाएगी दूर का मतलब दो सौ किलोमीटर नहीं है <laughs> यहाँ बैठ के दो सौ किलोमीटर भी दिख जाएगा उसको पांच सौ किलोमीटर भी दिख जाएगा ऐसा नहीं लोग तो अतिशयोक्ति करते हैं बस वो कहेंगे यहाँ पूना में बैठ के दिल्ली की घटना देख लेगा दूर से ही सुन लेगा क्या हो रहा है देख भी लेगा क्या हो रहा है ये ठीक है तैतालीस पूरा हो गया चवालीस चवालीस बोलिए स्वाध्यायात स्वाध्यायात इष्ट देवता इष्ट देवता संप्रयोग संप्रयोग इसका अर्थ है चवालीस सूत्र का स्वाध्यायात स्वाध्याय करने से इष्ट देवता जो हमारा इच्छित देवता है जिसकी हम इच्छा करते हैं परमात्मा परमात्मा की इच्छा करते हैं सब लोग ईश्वर से मिलना है ईश्वर प्राप्ति होनी चाहिए उससे हमारा मोक्ष होगा वही सारे सुख देगा तो इष्ट देवता ईश्वर हो गया उनसे संप्रयोग संबंध बनेगा स्वाध्याय करेंगे तो इष्ट देवता से ईश्वर से संबंध बनेगा क्योंकि स्वाध्याय में पता चलेगा ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है निराकार है सर्वशक्तिमान है न्यायकारी है दयालु है स्वाध्याय करेंगे तो पता चल जाएगा ईश्वर सृष्टि करता है सबका मालिक है सबका न्यायाधीश है पक्षपात रहित है आनंद का भंडार है सर्वशक्तिमान है सर्वज्ञ है ऐसे ऐसे स्वाध्याय करने से ईश्वर में रुचि बढ़ेगी और हमारा आकर्षण ईश्वर में होगा इस तरह से उससे हमारा संबंध जुड़ेगा संबंध बढ़ता जाएगा ये इसका लाभ है भाष्य देवा देवा ऋषय ऋषय सिद्धाश्च सिद्धाश्च स्वाध्यायशील स्वाध्यायशील दर्शनम दर्शनम गच्छन्ति गच्छन्ति कार्य चास्य कार्य चास्य वर्तन्ते वर्तन्ते जो व्यक्ति स्वाध्याय करेगा योग दर्शन पढ़ेगा सांख्य दर्शन पढ़ेगा न्याय दर्शन पढ़ेगा कणाद मुनि जी का वैशेषिक पढ़ेगा उपनिषदों को पढ़ेगा मनुस्मृति पढ़ेगा सत्यार प्रकाश पढ़ेगा वेदों को पढ़ेगा स्वाध्याय जब करेगा तो क्या होगा देवा ऋषय सिद्धाश्च देवता लोग ऋषि लोग और सिद्ध लोग स्वाध्यायशील से दर्शनम गच्छन्ति इस स्वाध्यायशील के दर्शन को प्राप्त होंगे अर्थात ये उनका दर्शन करेगा ऐसे दर्शन करेगा वो ऋषि पतंजलि तो चले गए कणाद मुनि तो चले गए कपिल मुनि तो चले गए उनका दर्शन कैसा होगा तो वो दर्शन आंख से नहीं होगा बुद्धि से होगा आप ताजमहल को देखिए ताजमहल को देखकर ताजमहल बनाने वालों का दर्शन होता है होता है ना इस तरह बनाने वाले कितने बुद्धिमान इंजीनियर थे कैसा बढ़िया बनाया आज तक 200-400 साल हो गए बिगड़ता ही नहीं कैसे खड़ा फर्स्ट क्लास तो ताजमहल को देखने से ताजमहल के बनाने वाले इंजीनियर्स का दर्शन होता है लाल किले को देखकर उसके बनाने वाले इंजीनियर्स का दर्शन होता है कंप्यूटर को देख के उसके बनाने वाले इंजीनियर का दर्शन होता है मतलब उसकी योग्यता समझ में आती है यह दर्शन से तात्पर्य तो देवताओं का दर्शन होता है जो विद्वान लोग हैं साक्षात पढ़ाने वाले हैं गुरुजन जब स्वाध्याय करेंगे गुरुजन पढ़ाएंगे तो उनकी योग्यता भी पता चलेगी पढ़ाने वालों की भी पता चलेगी और विद्या की भी लाभ होगा ईश्वर की योग्यता भी पता चलेगी ऋषया जिन ऋषियों ने वो शास्त्र लिखे योग दर्शन सांख्य दर्शन कपिल कणा जैवनी गौतम आदि उन ऋषियों की भी योग्यता पता चलेगी और सिद्धाश्चर्य और जो सिद्ध लोग हैं और भी इस तरह के जो भी मतलब ऊंची ऊंची योग्यता वाले लोग हैं जिस जिसकी भी हम पुस्तक पढ़ेंगे उनमें भी थोड़ी बहुत कैटेगरीज तो होती हैं कोई ऋषि स्तर को पहुंच गया कोई नहीं पहुंचा थोड़ा कम है जैसे चाणक्य आदि है इसने भी अच्छी महारत हासिल की योग्यता बनाई ऋषि तो नहीं बना प्रसिद्ध तो हो गया अपने काम में एक्सपर्ट था तो ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स लोग इंजीनियर्स लोग और बहुत सारे लोग मिलेंगे जो अपने अपने काम में एक्सपर्ट हैं उनकी पुस्तकें पढ़ेंगे तो उनका भी दर्शन होगा उनका ज्ञान पता चलेगा कितनी क्या योग्यता है इस प्रकार से स्वाध्याय करने वाले को इनका दर्शन होता है उनके ज्ञान विज्ञान और योग्यता से परिचय होता है और ये सारा स्वाध्याय करने से ये सारे सिद्ध ऋषि और देवता लोग विद्वान लोग अस्य कार्य वर्तनते थी इस व्यक्ति के कार्य में सहयोगी होते इसका कार्य था ईश्वर को जानना प्रकृति को जानना जीव को जानना तो इन ऋषियों की सहायता से वो इन सब चीजों को जान लेगा ईश्वर को भी समझ लेगा संसार को भी समझ लेगा और आत्मा को भी समझ लेगा और उसकी आगे प्रगति होती जाएगी ये स्वाध्याय का फल है ठीक है कोई शंका नहीं है चलिए कई लोग इसका उल्टा अर्थ करते हैं कि देवता सिद्ध लोग उसके दर्शन को आते हैं वो स्वाध्याय करता है तो आकाश में से उड़ते उड़ते आते हैं देवता लोग और उसको उसका दर्शन होता अच्छा हाँ ये पतंजलि महाराज घूम रहे ये कनाद मुनि आ गए ये महर्षि दयानंद जी आ गए उसको वो सिद्ध आकर के दर्शन देते हैं <laughs> ऐसा नहीं लोग ऐसी ऐसी कल्पनाएं करते हैं वो ठीक नहीं चलिए आगे पैतालीसवा बोलिए समाधि सिद्धिर समाधि सिद्धिर ईश्वर प्रणिधानात ईश्वर प्रणिधान सूत्र का अर्थ है ईश्वर प्रणिधान करने से पंचमी है सीधी सीधी ईश्वर प्रणिधान करने से समाधि सिद्धि ही समाधि की प्राप्ति होती है ये पांचवा नियम था ईश्वर प्रणिधान तो ईश्वर प्रणिधान का मतलब ईश्वर समर्पण उच्च स्तर का समर्पण एक एक घटना एक एक क्रिया एक एक कर्म ईश्वर को समर्पित करना है उसका कोई सांसारिक फल की इच्छा नहीं करनी बस मोक्ष चाहिए और कुछ नहीं चाहिए ईश्वर की अनुभूति ईश्वर का दर्शन ईश्वर की प्राप्ति समाधि चाहिए और कुछ नहीं चाहिए ऐसी भावना से पूरी ईमानदारी से सच्चाई से मेहनत से जब व्यक्ति ये काम करता है समर्पण करता है तो फिर ईश्वर उसको समाधि लगवा देता है समाधि लगवाना ईश्वर के अधिकार में हमारे हाथ में नहीं हम प्रयास कर सकते हैं बैठ सकते हैं मेहनत कर सकते हैं अध्ययन ध्यान चिंतन स्मरण उपासना कर सकते हैं प्रार्थना कर सकते हैं ईश्वर दर्शन देगा नहीं देगा वो उसके अधिकार में और वैसे अन्यायकारी तो है नहीं यदि हमारी योग्यता ठीक हो जाएगी तो दे ही देगा वो वो कंजूस तो है नहीं कि भाई खाम खा बचा के रखे नहीं दूंगा क्यों नहीं देगा भाई उसने सृष्टि बनाई इसीलिए कि तुम अच्छे अच्छे काम करो मैं देता हूं इसलिए वो तो कंजूसी नहीं करता है कंजूसी हमारी तरफ से रहती है हम काम नहीं करते हम बचना चाहते हैं मेहनत से बचना चाहते हैं समय नहीं लगाते दूसरे काम में उलझ जाते हैं उसको महत्व अधिक देते हैं अध्यात्म को महत्व कम देते हैं इसलिए फिर हमारी प्रगति नहीं होती पूरा समर्पण नहीं करते इसलिए ईश्वर समाधि नहीं लगवाता तो जो समाधि लगाने के लिए मेहनत करेगा ईश्वर समर्पण करेगा ईश्वर उसकी समाधि लगवाएगा भाष्यम ईश्वरार्पित ईश्वरार्पित सर्वभावस्य सर्वभावस्य समाधि सिद्धिर समाधि सिद्धिर यया यया सर्वम सर्वम ईप्सितम ईप्सितम अवितथम अवितथम जानाति जानाति देशांतरे देशांतरे देहांतरे देहांतरे कालांतरे च कालांतरे च भाष्यकार कहते हैं ईश्वर अर्पित से सभी भावनाओं से सभी प्रकार से मन वाणी शरीर से जो ईश्वर को अर्पित हो जाता है समर्पित हो जाता है अपनी इच्छाएं सारी छोड़ देता है अपनी मनमानी सब बंद कर देता है जो ईश्वर कहेगा वही करूंगा ईश्वर से पूछ पूछ के सारे काम करता है इस तरह से जो व्यक्ति काम करता है और चलता है जीवन में तो उसको समाधि सिद्धि उसको समाधि सिद्धि हो जाती है ईश्वर उसको समाधि लगवा देगा अपना स्वरूप दिखा देगा आनंद देगा ज्ञान देगा बल देगा उत्साह न्याय दया बहुत सारे गुण देगा उसको अपनी अनुभूति करा देगा ये समाधि हो गई तो उस समाधि से उसको क्या लाभ होता है यया सर्वम ईप्सितम अवितथम जानाती तो समाधि में ईश्वर के गुणों की प्राप्ति होती है ईश्वर के क्या गुण है सबसे बड़ा गुण है ज्ञान ज्ञान मिलता है आनंद मिलता है न्याय मिलता है दया मिलती है बहुत सारे गुण मिलते हैं तो जो ईश्वर का शुद्ध ज्ञान मिलता है उस ज्ञान की सहायता से सर्वम ईप्सितम जो कुछ वो चाहता है जो भी वस्तु जानना चाहता है कि प्रकृति के अंदर संसार के अंदर धन क्या है संपत्ति सोना चांदी पद प्रतिष्ठा आदि आदि इसमें कितना सुख है कितना नहीं है कितना दम है आदि आदि जो भी वो जानना चाहता है उन सब चीजों को अवितथम जानाती बिल्कुल ठीक ठीक जान लेता है जैसे हाथ के ऊपर मिठाई रखिए तो हम मिठाई को बड़ा साफ साफ देख रहे हैं अब कोई संशय नहीं है तो ऐसे ही ईश्वर से जो समाधि में ज्ञान मिलता है उससे एक एक चीज पूरी तरह समझ में आ जाती फिर उसको कोई शंका समस्या रहती नहीं क्या क्या जान लेता है देशांतरे देहांतरे कालांतरे च दूसरे देशों की बातें भी जान लेता है अब कैसे जान लेता है पहले वो संसार का परीक्षण करता है कुछ तो स्वयं अपने देश में घूम घाम के देखता है कि यहां कैसे कैसे सब्जियां हैं कैसे कैसे फल हैं कैसी कैसी मिठाइयां हैं क्या क्या सोना चांदी संपत्ति मकान मोटर गाड़ी सब वो देख लेता है थोड़ा बहुत खा पी के भी अनुभव कर लेता है और उसको समझ में आता है इसमें कोई सुख नहीं है थोड़ी देर का सुख है कोई स्थायी सुख नहीं है कोई इच्छाओं को शांत करने वाला सुख नहीं है कोई तृप्तिदायक सुख नहीं है वो जाता है चंडीगढ़ में रोज गार्डन देख कर आता है फिर जाता है वो लेक देख कर आता है चंडीगढ़ की फिर रॉक गार्डन देख के आता है फिर शिमला मसूरी घूम कर आता है फिर ऊटी भी जाता है साउथ में वो भी घूम आता है तो घूम घूम के देख लेता है यहाँ कुछ नहीं थोड़ी देर का सुख है फिर खत्म तो इस आधार पर वो समाधि में बैठ के ईश्वर से पूछता है कि जैसे भारत में कई चीजें मैंने देख ली शिमला कुल्लू मनाली मसूरी चंडीगढ़ बेंगलोर मैसूर ऊटी घूमया देखा कोई तृप्ति तो हुई नहीं वो पूछता ईश्वर से क्या स्विट्जरलैंड में लंदन में अमेरिका में ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में क्या वहां भी ऐसा ही है या वहां इससे कोई और ऊंची बढ़िया चीज है जिसको देखने से बड़ी तृप्ति हो जाएगी तो ईश्वर उसको बताता है जैसी धरती यहां है वैसी वहां है जैसी सड़कें यहां ऐसी वहां है जैसे लोग यहां ऐसे वहां है जैसी दीवारें दुकानें यहां होती हैं ऐसी दीवार दुकान वहां भी होती है तो सब एक जैसा ही है उधर को फालतू भटकने की जरूरत नहीं है तो देशांतरे क्यों क्यों मस्ती अत्रैव ज्ञानम भवती वो देश, देश, देश दुनिया में क्या क्या है वो सब यही समझ में आ जाता है इसलिए उसको बाहर भटकना नहीं पड़ता कि आज मॉरिशस जा रहे हैं फिर कनाडा जा रहे हैं फिर हॉलैंड जा रहे हैं कोई जरूरत ही नहीं जाने की यहीं बैठे बैठे सब समझ में आ गया यही सत्वरजतम भारत में है यही शत्रुरजतम इंग्लैंड में है अफ्रीका में है अमेरिका में है हॉलैंड में है जब यहाँ के सत्वरजतम से तृप्ति नहीं हुई तो वहां वाले से भी नहीं होगी सेम क्वालिटी है तो ऐसा ऐसा उसको ज्ञान हो जाता है ईश्वर उसको इस तरह का ज्ञान दे देता है ऐसा ज्ञान नहीं देता कि अमेरिका के व्हाइट हाउस में क्या हो रहा है इस समय क्या घटना चल रही है कोई वहां सीसीटीवी लगा के उसको पूरी पिक्चर दिखा दे <laughs> ऐसा नहीं होता है ऐसा नहीं होता तो देशांतर में क्या हो क्या क्या चीजें हैं उनमें कितना सुख है कितना क्षमता है तृप्तिदायक वो सब यहीं बैठे बैठे पता चल जाता है उसको भटकना नहीं पड़ता दूर दूर देहांतर ऐचा और अब मेरे शरीर में जैसा है ऐसा ही दूसरे के शरीर में ये भी पंचमाभूत से बना है वो भी पंचमाभूत से बना है तो उधर भटकने की क्या जरूरत है अपना तो देख ही लिया सब समझ में आ ही गया तो ईश्वर उसको अंदर ही अंदर सब ज्ञान दे देता है कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है और कालांतर है और कालांतर में सौ साल के बाद दो सौ साल के बाद हजार साल के बाद बीस लाख साल के बाद क्या होगा वो उसको आज ही समझ में आ जाता है और पीछे लाखों साल पहले क्या था वो भी आज ही समझ में आ जाता है कालांतर की बातें लोग कहते हैं सतयुग बहुत अच्छा था कलयुग बहुत खराब है मैं पूछता हूं क्यों खराब है ये कलयुग में सारे चोर बेईमान है झूठ बोलते हैं हेरा फेरी करते हैं कलयुग ऐसा ही बेकार है और सत्यु बहुत अच्छा था उसमें सब लोग अच्छे थे मैंने कहा ना आपको भ्रांति है आप झूठ बोल रहे हैं सब अच्छे नहीं थे बोले कैसे आप कैसे कह सकते हैं मैंने कहा हमारे पास तो मोटे मोटे सिद्धांत है गणित के हम फटाफट गिनती कर लेते हैं हमको सब समझ में आ जाता है शास्त्रों को पढ़ते हैं परमात्मा का ध्यान करते हैं चिंतन मनन करते हैं हमको बहुत सी बातें भगवान बता देता है हमारा ज्ञान अच्छा बढ़ा बढ़ा देता है शुद्ध कर देता है हम शास्त्रों से प्रमाणों से विचार करते हैं हमको ईश्वर बहुत ज्ञान देता है और हम यहीं बैठे बैठे कालांतर की बातें जान लेते तो ये कहना गलत है कि सतयुग में सारे लोग अच्छे थे बोले क्यों मैंने पूछा अच्छा ये बताओ सतयुग में कोई गाय घोड़ा कुत्ता बिल्ली हाथी बंदर था या नहीं था थे ना तो वो कौन बनाता था ईश्वर तो ईश्वर न्यायकारी है या अन्यायकारी न्यायकारी तो न्यायकारी ईश्वर बिना अपराध के बनाएगा या अपराध करने पर बनाएगा तो आपने कहा कि सतयुग में भी कुत्ते गधे भेड़ बंदर बकरी थे तो इसका मतलब तब भी अपराध होते ही है ना तो सारे अच्छे कहां थे और कलयुग में भी द्वापर में भी त्रेता में भी सतयुग में भी चारों युगों में गाय घोड़े होते हैं कुत्ते गधे होते हैं बिल्ली बंदर सब होते हैं चिड़िया कबूतर सब होते हैं इसका मतलब हमेशा ही पाप होते हैं ये तो हमेशा ही चलते हैं अनादिकाल से चल रहे हैं अनंत काल तक चलेंगे देखो ये कालांतर में क्या हो रहा है यहीं बैठे बैठे पता चल जाता है तो जैसे भूतकाल की बात पता चल गई कि तब भी पाप होते थे लोग अपराध करते थे और कुत्ते गधे बनते थे अब ऐसे ही भविष्य का अनुमान लगा लो क्या भविष्य में गधे घोड़े सुअर बंदर हाथी बनने पैदा होने बंद हो जाएंगे नहीं, नहीं होंगे ना पैदा होंगे ना होंगे। इनको कौन पैदा करेगा ईश्वर करेगा मुफ्त में करेगा या अपराध करने पर अपराध करने तो इसका अर्थ क्या हुआ भविष्य में भी अपराध बंद होने वाले नहीं। नहीं है इसलिए हमारे गुरु जी कहते हैं ये दुनिया सुधरने वाली नहीं है <laughs> ये दुनिया सुधरने वाली नहीं है ये ऐसे ही चलेगी तुम इसकी टेंशन मत करो इसकी चिंता मत करो तो क्या करो अपनी चिंता करो हम जब चले ना प्रचार में तो पूछा गुरु जी ने कहा जा रहे हो हमने कहा गुरु जी प्रचार में जा रहे हैं क्या करोगे हमने कहा लोगों का सुधार करेंगे अच्छा एक बात ध्यान रखना ये दुनिया सुधरने वाली नहीं है तुम अपना ध्यान रखना तुम मत बिगड़ जाना मात्रा में कम फर्क पड़ जाता है गड़बड़ी की मात्रा में पहले कम मात्रा में गड़बड़ी थी अभी ज्यादा ना ऐसा नहीं है हाँ? ऐसा नहीं है? पहले कितनी गौ थी द्वापर में कृष्ण जी के जमाने में कितनी गौएं होती थी लोग पचास पचास हजार गाय रखते थे उनकी उनकी डिग्रियां होती थी जैसे आज करोड़पति अरबपति होती है ना तो ऐसे कोई बीस हजार गाय रखता था कोई पचास हजार गाय रखता था तो उनको कोई नंद बोलते थे कोई क्या क्या ऐसी ऐसी डिग्रियां होती थी उनकी तब लोग पचास पचास हजार गाय रखते थे आज कहा इतनी को तो जब गाय ज्यादा थी तो तब पाप ज्यादा होते हैं कि आज ज्यादा होते हैं <laughs> तो पशु पक्षी पहले भी थे आज भी है आगे भी रहेंगे तो जी ने कहा यह दुनिया सुधरने वाली नहीं है लोग पाप करेंगे और ठीक है तुम जाओ सुधार के लिए हम रोकते नहीं है मना नहीं करते हम निराशावादी भी नहीं है हम ये नहीं कह रहे कि जब दुनिया सुधरेगी नहीं तो फिर आप मेहनत क्यों कर रहे हैं हम ये भी नहीं कह रहे करो मेहनत कोशिश करो सुधारने की पर यह ध्यान रखना सब लोग नहीं सुधरेंगे कोई कोई सुधरेगा कौन सुधरेगा जिसके पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे होंगे वो सुधरेगा जिसको बचपन में माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए होंगे वो सुधरेगा और जो स्वयं मेहनत करेगा वो सुधरेगा बस ये लोग सुधरेंगे तो ढूंढो जाओ देश में जाओ घूमो फिरो जो पूर्व जन्म का अच्छा संस्कारी हो जिसको बचपन से माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए हो और जो खुद मेहनती हो पुरुषार्थी हो ऐसे आदमी ढूंढ लो उनको सुधारते रहो बाकियों को छोड़ देना और लगे दुनिया को सुधारने और खुद ही बिगड़ गए तो क्या कमाया आपने इसलिए अपना ध्यान रखना तुम मत बिगड़ जाना तो हमने कहा यह सर आपकी बात हमें स्वीकार है दुनिया सुधरे या ना सुधरे हम नहीं बिगड़ेंगे हम पहले अपना ध्यान रखेंगे और फिर दूसरी बात यह सिखाई गुरु जी ने कि दुनिया सुधरे या ना सुधरे हम जरूर सुधरेंगे हमने कहा ठीक है हमें दोनों बात स्वीकार है हम जरूर सुधरेंगे हम नहीं बिगड़ेंगे अपना ध्यान रखते हुए अपना व्यवहार जीवन ठीक ठाक रखते हुए फिर लोगों को कोशिश करेंगे सुधारने की जो सुधरना चाहेगा सुधार देंगे नहीं सुधरना चाहेगा तो नमस्ते कर लेंगे झगड़ा नहीं करेंगे नहीं सुधरना चाहो कोई बात नहीं छोड़ दे तो ऐसे हमको प्रयास करना चाहिए अभ्यास करना चाहिए तो हमारा जीवन भी ठीक रहेगा और कुछ देश का भी भला कर देंगे तो हम निराशावादी नहीं है आलसी नहीं है पुरुषार्थहीन नहीं है पूरी मेहनत करते हैं तीन दिन काम करते हैं एक भी छुट्टी नहीं मनाते उदास बिल्कुल नहीं है पूरे जोश के साथ काम करते हैं फिर भी हम ये मानते हैं कि बहुत लोग नहीं सुधरेंगे जितने सुधरेंगे सुधरेंगे उनको भी लाभ होगा और हम जो काम करेंगे उसका हमको भी लाभ होगा तो दोनों को लाभ है ऐसे हमको करना चाहिए तो कालांतर में क्या होगा वो भी समझ में आ जाता है देशांतर में क्या है वो भी समझ में आ जाता है देहांतर में क्या है वो भी समझ में आ जाता है सब समझ में आ जाता है एक पंक्ति और पढ़िए तत्वस्य प्रज्ञा प्रज्ञा यथाभूतम यथाभूतम प्रजानाति प्रजानाति इति तो इस समाधि के अंतर्गत जो व्यक्ति को ईश्वर से ज्ञान मिलता है तथा उस ज्ञान से अस्य प्रज्ञा इसकी बुद्धि ऐसी बढ़िया हो जाती है परफेक्ट यथाभूतम जानाती जो चीज जैसी है वो वैसा ही जानेगा ठीक ठीक जानेगा सत्य ही जानेगा न उसको भ्रांति न संशय एकदम सारा क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल साफ सुथरा उसको ज्ञान होगा कोई भ्रांति नहीं कोई संशय नहीं शुद्ध ज्ञान होगा ये इसका लाभ है तो इस प्रकार से ईश्वर प्रणिधान करने से समाधि की प्राप्ति होती है यम नियमों के फल पूरे हो गए और इसका पाठ यहीं विराम रखते हैं यहीं विराम देते हैं बाकी चर्चा फिर करेंगे एक बार ओम बोलेंगे लंबे स्वर से ओम सर्वेभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः सबको सादर नमस्ते जी सबको सादर नमस्ते